मंत्र पाठ करेंगे ओ सहना सहनौ भुनक्तु सहवी योग दर्शन दूसरा पाद सूत्र तीस चल रहा था इसमें पांच यम बतलाए गए हैं एक बार नाम बोलेंगे अहिंसा अहिंसा सत्य सत्य अस्तेय अस्तेय ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अपरिग्रह ये पांच यम हैं इनमें से अहिंसा की बात पूरी हो गई अब सत्य की बात चल रही थी कल तो सत्य का मतलब है सत्यम यथार्थे वांग मन से जैसी वस्तु हो वैसा ही मन में मानना वैसा ही वाणी से बोलना और जैसी वस्तु हो वैसा व्यवहार करना तो मन वाणी शरीर तीनों में एक रूपता होनी चाहिए इसका नाम सत्य है ये एक रूपता किस तरह से होनी चाहिए यथा दृष्टम यथानुमितम यथाश्रुतम जैसा प्रमाण से जैसा प्रत्यक्ष प्रमाण से ठीक ठीक जाना हो प्रमाण को ध्यान रखना हम्म। उल्टा सुल्टा जान लिया उल्टा सुल्टा बोल दिया वो ठीक नहीं है वो सत्य नहीं माना जाएगा प्रमाणों से प्रत्यक्ष से अनुमान से शब्द प्रमाण से ठीक ठीक जानिए कौन सी वस्तु कैसी है और फिर वैसा ही ठीक ठीक जानकर वैसा ही वाणी से बोलना वैसा ही मन में रखना वैसा ही व्यवहार करना ये सत्य है अब इसका उद्देश्य है अहिंसा की रक्षा करना एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछा कि आपने बताया मन वाणी और शरीर की एक रूपता होनी चाहिए ये सत्य है तो एक व्यक्ति ने मन में सोचा कि आज मैं पड़ोसी की टांग तोड़ूंगा मन में ऐसा सोचा अपने पड़ोसी की टांग तोड़ूंगा और वैसा ही उसने अपने मित्र को बोल दिया वाणी से कि आज मैं इसकी टांग तोड़ूंगा और शरीर से भी लाठी लेके उसने उसकी टांग तोड़ दी क्या ये सत्य नहीं हुआ मन वाणी और शरीर तीनों में एक रूपता तो हो गई मन में भी सोचा टांग तोड़ूंगा वाणी से भी बोला टांग तोड़ूंगा और शरीर से टांग तोड़ भी दी तो मन वाणी शरीर की एक रूपता तो हो गई परंतु ये पुण्य की कोटि में नहीं तो भाष्यकार सूत्रकार सिर्फ इतना नहीं कहना चाहते कि तीनों में एक रूपता होनी चाहिए ये एक रूपता होते हुए इसका उद्देश्य अहिंसा की रक्षा करना है अहिंसा भी होनी चाहिए उससे इसीलिए इसका विधान किया गया अगर इस तीनों की एक रूपता होने से हिंसा होती है अन्याय होता है दूसरे को दुख अनावश्यक रूप से दुख दिया जाता है तो ये सत्य नहीं माना जाएगा ये पुण्य की कोटि में नहीं आएगा यहां तो सारे के सारे पुण्य कर्म है इसलिए हम इसको सत्य नहीं मानेंगे भले ही एक रूपता हो तो यहां पर एक रूपता तीनों की एक रूपता वो सत्य की कोटि में आएगी जो अहिंसा की रक्षा भी करे जैसे इससे उल्टा उदाहरण लेते हैं एक व्यक्ति ने कहा कि आज मैं अपने पड़ोसी की सहायता करूंगा आज वो अकेला है घर में और रोगी है बीमार है घर में कोई है नहीं उसके मन में ऐसा आया कि आज उसकी सेवा करूंगा ऐसा ही उसने अपने मित्र से वाणी से भी कहा कि आज मैं अपने पड़ोसी की सहायता करूंगा और शरीर से जाके उसकी सेवा भी की चार घंटा तो अब ये तीनों में एक रूपता हो गई जैसा मन में था वैसा ही वाणी से बोला वैसा ही शरीर से आचरण भी किया और इससे अहिंसा की रक्षा भी हुई तो इसको सत्य की कोटि में मानेंगे ये कहना चाहते हैं सूत्रकार और भाष्यकार तो जो वक्ता जिस बात को कहना चाहता है उसके वचनों से वही अभिप्राय लेना चाहिए तो तो हमने शास्त्र को ठीक समझा अन्यथा हम भटक गए ऐसा समझना चाहिए तो हमको भटकना नहीं है जो कुछ वो कहना चाहते हैं वही बात हम समझने का प्रयास करेंगे और वही फिर आचरण में लाएंगे अब आगे पढ़ते हैं परत्र परत्र स्वबोध स्वबोध संक्रांत ये संक्रांत वागुक्ता वागुक्ता सा यदि सा यदि न वंचिता न वंचिता भ्रांता वा भ्रांता वा प्रतिपत्ति बंध्या वा प्रतिपत्ति बंध्या वा भवेदिति भवेदिति अब इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भाष्यकार आगे लिख रहे हैं कि हम सत्य का विधान क्यों कर रहे हैं अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा नहीं होनी चाहिए उस वाणी से जो भी हम बोलते हैं तो कहते हैं परत्र दूसरे व्यक्ति में अत्र यहां तत्र वहां परत्र दूसरे में दूसरे मनुष्य में स्वबोध अपना ज्ञान अपना विचार मेरा एक विचार है मैं जैसा मानता हूं जानता हूं और मैं अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाना चाहता हूं कुछ बताना चाहता हूं भाई आप बाजार जाओगे तो मेरे लिए सब्जी लेते आना कैसे मैं अपना विचार उसको बताना चाहता हूं आप बाजार जा रहे हैं तो मेरे लिए सब्जी लेते आना ठीक है अपना ज्ञान दूसरे तक पहुंचाने के लिए संक्रांत ये दूसरे तक पहुंचाने के लिए वाग उक्ता जो मैंने वाणी बोली जो शब्द बोले जो भाषा बोली सा वह वाणी यदि न वंचिता वो ठगने वाली नहीं होनी चाहिए ठगने वाली मूर्ख बनाने वाली धोखा देने वाली ऐसी वाणी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो हुई तो फिर वो छल कपट हो गया तो फिर तो धोखेबाजी हुई तो हिंसा हो गई वो तो अन्याय हो जाएगा तो वो अहिंसा नहीं रहेगी इसलिए हमको कैसी वाणी बोलनी अपना विचार दूसरे तक पहुंचाने के लिए अच्छी बढ़िया शुद्ध भाषा बोलनी ठगने वाली नहीं धोखा देने वाली नहीं बोलनी भ्रांतावाद यदि वो भ्रांति उत्पादक भाषा बोली तो भी गड़बड़ छलकपट वाली बोली तो भी गड़बड़ और भ्रांति पैदा करे वैसी बोली तो भी गड़बड़ प्रतिपत्ति बंध्यावा और ऐसी भाषा बोली उसको कुछ समझ ही नहीं आया प्रतिभक्ति ज्ञान बंध्या उत्पन्न ही नहीं हुआ ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हुआ उसको समझ ही नहीं आया मैं क्या कहना चाहता हूं कई लोग लंबी लंबी बात करते हैं दस मिनट तक अपनी लंबी बात कहानी सुनाएंगे और पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा कहना क्या चाहते हैं सार क्या हुआ समझ में नहीं आया तो ये भी बेकार है तो ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए तीन सावधानियां यहां पर बताई ठगने वाली ना हो भ्रांति उत्पादक ना हो और कुछ समझ ही नहीं आए ऐसी भी ना हो फिर कहते हैं एशा एशा सर्वभूत सर्वभूत उपकारार्थम उपकारार्थम प्रवृत्ता प्रवृत्ता न न भूतोपघाताय भूतोपघाताय तो ये जो वाणी हम बोलते हैं ऐशा वाक जो वाणी हम बोलते हैं यह भाषा सर्वभूत सब प्राणियों का उपकारार्थम उपकार करने के लिए सबका भला करने के लिए हमारी भाषा होनी चाहिए हमारी वाणी से किसी का भला होना चाहिए नुकसान नहीं प्रवृत्ता न भूतोपघाता है प्राणियों के विनाश के लिए हानि के लिए नुकसान के लिए दुख देने के लिए ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए इसलिए मीठी भाषा बोलो कल बात चल रही थी ना सच होता ही कड़वा है <laughs> तो उसका समाधान है सच कड़वा भी होता है मीठा भी होता है तो कड़वा मत बोलो मीठा बोलो अच्छी तरह बना के बोलो ताकि दूसरे को बुरा नहीं लगे कष्ट ना हो मतलब जिस भाषा को हम मीठा बना सकते हैं उसको तो बनाओ मधुर हाँ और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बात ही ऐसी होती है वो सामने वाले को कड़वी ही लगेगी आप चाहे जितनी मीठी बनाओ वो कड़वी तो कड़वी ही रहेगी ना नीम तो कड़वी ही रहेगी शुगर कोटिंग कर लो जहां तक हो सके कर लो फिर जब वो अंदर जाएगी तो फिर तो कड़वाट कहीं तो कहीं ना तो आएगी ना नीम के पत्ते को में तो, तो कड़वाई लगे चबाएंगे तो कड़वाई लगेगा ना थोड़ा सा मीठा शुगर कोटिंग हो जाएगी तब भी कड़वाट तो रहेगी फिर भी जहां तक हो सके उसको शुगर कोटेड बोलो बोलना पड़े तो महर्षि मनु जी ने कहा है सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम अप्रियम देखो स्पष्ट बात है ना सच बोलो मीठा बोलो अप्रियम न कड़वा मत बोलो इससे पता चलता है सच मीठा भी होता है कड़वा भी होता है दोनों हो सकते हैं उस वचन से भी सिद्ध हो रहा है मीठा भी बोलो मीठा भी हो सकता है कड़वा भी हो सकता है वो कहते हैं मीठा सच बोलो कड़वा मत बोलो एक पेंसिल पेंसिल पेंसिल और गिरी नीचे ये पेंसिल उठा दो पेंसिल अंदर से गई लगती सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात सच बोले मीठा बोले सच मीठा भी हो सकता है कड़वा भी हो सकता है न ब्रुयात सत्यम अप्रियम कड़वा सच न बोले एक और सावधानी प्रियम च न अनृतम ब्रुयात मीठा तो बोले पर मीठा बोलते बोलते झूठ नहीं बोले अंडरकम ना भूले झूठ नहीं बोलना मीठा बोलो सच बोलो बढ़िया सच बोलो मीठा बना के बोलो आजकल लोग जब वो किसी की प्रशंसा करते हैं तो वो चापलूसी करते हैं और वो मीठा तो बोलते हैं पर वो झूठ भी बोलते हैं साथ में एक जो क्या लगा बीच में सुना दो एक नेताजी थे उनकी मृत्यु हो गई तो अंतिम शोक समाप्ति होती है तो लोग आते हैं श्रद्धांजलि देने तो उनकी श्रद्धांजलि सभा चल रही थी तो बहुत सारे परिचित लोग आए सब उनके बारे में श्रद्धांजलि दे रहे थे अच्छी अच्छी बात बता रहे थे बड़े बड़े गुण गा रहे थे उनके तो सब परिवार के लोग बैठे थे पत्नी भी थी बच्चा भी था सब बैठे थे जब नेताजी के गुण गा रहे थे लोग तो उनकी पत्नी बच्चा सब सुन रहे थे तो पत्नी ने अपने बच्चे से कहा कि लोग इतनी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं लोग तो ये जो मरने वाला था तेरा पिताजी पिताजी मरा है कोई और मरा है किसकी किसकी प्रशंसा कर रहे हैं मतलब मरने वाला इतना गुणवान तो था नहीं जितने ये गीत गा रहा है तो लोग ऐसे झूठ बोलते हैं जीते जी भी प्रशंसा करते हैं फालतू भी जो गुण उसमें नहीं होते बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं और मरने के बाद तो खूब ज्यादा बोलते हैं तो इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए बहुत नाप तोल के बोलना पड़ेगा जैसी चीज है वैसी बोलो जितने गुण है उतने बोलो कम भी नहीं अधिक भी नहीं जानकारी नहीं हो तो कह दो भाई मुझे पूरा नहीं मालूम ऐसे लगभग जितना मैं समझता हूं मेरी समझ में ऐसा आया तो इस तरह से क्या है हम झूठ बोलने से बच जाएंगे भ्रांति भी पैदा नहीं होगी संशय भी नहीं होगा और कोई ठगने वाली बात भी नहीं रहेगी और ऐसा भी नहीं है कि कुछ समझ ही नहीं आया लोगों को वो बात भी नहीं है और दुख देने का भी कोई उद्देश्य नहीं है हिंसा वाला कोई उद्देश्य नहीं है इस प्रकार से हमको बहुत सावधानी से बोलनी चाहिए भाषा तब वो सत्य बनेगा आगे बढ़ते हैं यदि च एवं यदि च एवं अपि अपि अभिधीयमाना अभिधीयमाना भूतोपघात परा भूतोपघात परा एव स्यात् एव स्यात् न सत्यम भवे न सत्यम भवे पापम एव भवे पापम एव भवे देखो स्पष्ट कर दिया इसलिए यदि हम ऐसी भाषा बोलते हैं जो ठगने वाली है शांति उत्पादक है या कुछ भी समझ में नहीं आया खाम खाम उसका दस मिनट समय नष्ट हुआ और सब प्राणियों के कल्याण के नहीं बोली के लिए नहीं बोली दुख देने के लिए बोली हानि करने के लिए बोली हिंसा के लिए अन्याय के लिए बोली तो इस तरह से बोली गई भाषा भूतोपघात परा एव सियात वो भूतों का प्राणियों का नुकसान करने वाली ही होगी न तत् सत्यम भवेत वो सत्य नहीं कहलाएगा पापम एव भवेत वो पाप ही कहलाएगा इसलिए बहुत नाप तोड़ के सोच समझ के प्रमाणों से परीक्षा करके फिर बोलना चाहिए नहीं आया समझ में तो बोल दो नहीं आया फिर देखेंगे सीखेंगे कभी आ जाएगा समझ में बता देंगे नहीं आया तो नहीं सही हम परमात्मा है नहीं सर्वज्ञ हैं नहीं हम सब बात की गारंटी नहीं ले सकते जितना समझ में आया उतना बताएंगे हम उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे पहले ठीक ठीक जानकारी करेंगे फिर आपको बताएंगे तेन तेन पुण्याभासेन पुण्याभासेन पुण्य प्रतिरूपकेण पुण्य प्रतिरूपकेण कष्टतम कष्टतम प्राप्नुयात प्राप्नुयात तो इस पुण्य आभास से अब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो किसी को धोखा देता है झूठ बोलता है छलकपट करता है मूर्ख बनाता है उसको ठग लेता है तो वो समझता है आज मैंने बहुत अच्छा किया आज इतने लोगों को लूट लिया इतने लोगों को मूर्ख बनाया इतने लोगों को धोखा दिया मजा आ गया वो समझता मैंने बहुत अच्छा किया उसको पुण्य समझता है जबकि वो पुण्याभास है पुण्य नहीं है वो पुण्य जैसा उसको प्रतीत हो रहा मैंने बहुत अच्छा किया कभी कभी व्यक्ति कठोर भाषा भी बोलता है हिंसा के क्षेत्र में कभी कभी कठोर भाषा भी बोलता है गुस्सा करता है और वो ये मानता है मैं ठीक गुस्सा कर रहा हूं मैं ठीक कर रहा हूं गुस्सा वो भी उसके लिए हानिकारक है वो ठीक नहीं कर रहा उसके संस्कार खराब हो रहे हैं उसकी क्रोध की आदत बढ़ती जाएगी द्वेष बढ़ता जाएगा और उसको वो जीत नहीं पाएगा पर वो उसको समझता मैं ठीक कर रहा हूं जिस समय व्यक्ति क्रोध करता है उस समय उसको ऐसा ही लगता है मैं ठीक कर रहा हूं मैं ठीक बोल रहा हूं जब उसका गुस्सा उतर जाता है दो घंटे चार घंटे में तब वो दोबारा विचार करता है मैंने क्या बोला उस समय तब उसको पता चलता है मैंने गलत बोला बाद में समझ आता है कि मैंने गलत बोला ऐसा नहीं बोलना चाहिए था अब समझ में आया जब गुस्सा उतर गया तो इससे एक बात समझ में आई कि जब व्यक्ति क्रोध में होता है तब उसकी बुद्धि काम नहीं करती तब उसकी बुद्धि ठीक काम नहीं करती इसलिए क्रोध की स्थिति में कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए क्योंकि उस समय का निर्णय गलत ही होगा वो ठीक नहीं हो सकता बुद्धि उस समय ठीक काम नहीं करती है हमने बहुत लंबे परीक्षण किए अपने भी दूसरों के भी खूब परीक्षण किए तब जाके ये सार निकला सिद्धांत निकला कि क्रोध की स्थिति में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए जब क्रोध ठंडा हो जाए उतर जाए दिमाग साफ हो जाए शांत हो जाए फिर दोबारा से नए सिरे से सोचना चाहिए कि इस मामले में क्या किया जाए इस विषय में क्या निर्णय लिया जाए फिर नए सिरे से सोचो तो आपका निर्णय उस समय अलग होगा तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए तो कह रहे हैं तेन पुण्याभासेन उस पुण्य आभास से झूठ बोलने से छल कपट से चालाकी से उसको ऐसा लग रहा है मैंने बहुत अच्छा किया है वो भ्रांति पुण्य का आभास है पुण्य प्रतिरूप केण इसी को खोल दिया इन्होंने पुण्य का प्रतिरूप है वो पुण्य नहीं है पुण्य का पुण्य जैसा दिख रहा है ऐसे कर्म से कष्टतम प्राप्त उसको दुख मिलेगा दंड मिलेगा उसको अच्छा नहीं समझना चाहिए हानिकारक दुखदायक समझना चाहिए तस्मात तस्मात् परीक्ष्य परीक्ष्य सर्वभूत हितम सर्वभूत हितम सत्यम सत्यम ब्रूयात ब्रूयात इसलिए सारी बात का सार ये हुआ इसलिए परीक्ष्य परीक्षा करके प्रमाणों से परीक्षा करके स्पष्टीकरण हो गया ना यथा दृष्टम यथा श्रुतम यथा अनुमितम उसका स्पष्टीकरण हो गया इसलिए परीक्षा करके सर्वभूत हितम सब प्राणियों का हितकारी सत्यम ब्रुयात वो सत्य बोले जिससे दूसरे का हित होता अहित करने वाला नहीं तो इसमें हमको बहुत बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं सत्य बोलने में कहीं कहीं पर अपात्र सम्मुख हो तो वहां चुप भी रहना पड़ता है मौन भी रहना पड़ता है वहां नहीं बोलना सब बातें नहीं बतानी कई प्रेस वाले आते मंत्रियों के सामने सब इस विषय में आपका क्या विचार है वो कहते हैं नो कमेंट्स हम कुछ नहीं बताएंगे ये हमारी प्राइवेट प्राइवेट पॉलिसी है ये हम नहीं बताएंगे तो सब बात नहीं बताने की होती नहीं बताएंगे जो बताने की वो बताएंगे जो नहीं बताने की नहीं बताएंगे कोई व्यक्ति आपसे पूछे आप एक महीने में कितना रुपया कमाते हैं तो आप कहेंगे हम नहीं बताते क्यों होता है आपके पास कितनी संपत्ति है हम नहीं बताते ये हमारी प्राइवेट बात है सारी बात थोड़ी बताते जो बताने जैसी है वो बताएंगे ताकि दूसरा व्यक्ति उसका दुरुपयोग ना करे इसलिए वो नहीं बताएंगे तो मौन रहने का विधान है शास्त्र में कहीं आपको ऐसा लगता है कि यहां बताना ठीक नहीं है तो वहां चुप रहेंगे और जहां बताना ठीक लगे वहां बताएंगे पर बताएंगे तो सच बताएंगे झूठ नहीं बोलेंगे झूठ नहीं बोलना अभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला कम योग्यता रखता है तो सारी बात वो समझ नहीं सकता तब उसको कम बताएंगे जितनी समझ सकता है उतनी बताएंगे आठ साल का बच्चा है एक बाईस साल का जवान है बाईस साल वाला एमएससी पढ़ा हुआ है आठ साल वाला तीसरी क्लास में पढ़ता है दोनों ने एक ही सवाल पूछा तो दोनों को एक जैसा उत्तर तो नहीं देंगे वो थोड़ा समझता है उसको थोड़ा उत्तर देंगे वो अधिक समझता है उसको अधिक उत्तर देंगे तो कोई यूं आरोप लगाए साहब देखो उसने आपने बच्चे को तो थोड़ा सा ही बताया उसको इतना लंबा बताया तो तो आप सच नहीं बोलते आप गोल गोल करते हैं किसी को कुछ बताते हैं किसी को कुछ बताते हैं तो ये सब झूठा होगा वो लोग समझते नहीं है कि कब कैसा कहा कितना बोलना चाहिए तो सत्य का नियम ये होता है कि जो जितना समझ पाए उसको उतना बोलो जो हमारी बात से लाभ उठाए उसको वो बात बताओ जो नहीं लाभ उठाता उसको छोड़ दो और मूर्ख सामने आ जाए तो बिल्कुल ही चुप रहो कुछ नहीं बोलना ऐसा भी ये विधान ये मोटी मोटी बातें थी सत्य के संबंध में अब आगे चलते हैं अस्ते तीसरा यम है अस्ते उसकी व्याख्या आरंभ होती है बोलिए स्तेयम स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम द्रव्याणाम परत परत स्वीकरणम स्वीकरणम तत्प्रतिषेध तत्प्रतिषेध पुनः पुनः अस्पृहरूपम अस्पृहरूपम अस्तेयम अस्तेयम इति तो अस्तेय शब्द को समझाने के लिए पहले स्तेय को समझाएंगे जैसे अहिंसा शब्द है उसका मूल शब्द है हिंसा फिर शुरू में अ लगा करके अहिंसा बनाया नई तत्पुरुष समास ऐसे ही स्तेय मूल शब्द है फिर उसमें अ लगा के अस्ते बनाएंगे नन तत्पुरुष समास फिर उसका अर्थ उलट जाएगा तो पहले स्तेय को समझाते हैं स्तेय क्या है स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरण स्तेय का अर्थ है शास्त्र के नियम से विरुद्ध अशास्त्र पूर्वकम शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध द्रव्याणाम वस्तुओं का परतः स्वीकरण दूसरों से छीन लेना खींच लेना उठा लेना प्रयोग कर लेना शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध वस्तुओं का दूसरे से छीन लेना या दूसरों की चीजों का उपयोग करना यह है स्तेय तो शास्त्र की मर्यादा क्या है शास्त्र की मर्यादा वेदों की मर्यादा यह है उसका नियम यह है कि किसी भी व्यक्ति की वस्तु है उसकी संपत्ति है उससे पूछे बिना प्रयोग मत करो उससे पूछ के प्रयोग करो आप गए गए किसी मित्र के यहां और आप उससे बातचीत कर रहे थे थोड़ी देर के लिए वो मित्र अपने दूसरे कमरे में गया कुछ काम से हमने एक टेलीफोन रखा था उसका मित्र का आपको इच्छा हुई एक फोन कर लू घर पे कुछ मैसेज देना सूचना अब फोन तो है आपके मित्र का आपका तो है नहीं वो आपकी संपत्ति नहीं है और आपने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करना शुरू कर दिया फोन का स्त्रिया ये चोरी है लोग इसको चोरी नहीं मानते पर शास्त्र कहता है ये चोरी है ये आपकी संपत्ति नहीं है जिसकी संपत्ति है उससे पूछो क्या मैं एक फोन कर सकता हूं उससे पूछो वो स्वीकृति दे तो फोन करो नहीं तो नहीं उससे पूछे बिना हाथ भी नहीं लगाना तो बिना पूछे जब हम किसी की वस्तु का प्रयोग करते हैं तो मन में लालच आता है बुरी भावनाएं पैदा होती हैं वस्तु को उठा ले जाने की भी इच्छा हो सकती है आगे चलकर भाई बहुत अच्छी चीज है मैंने इसका उपयोग किया बढ़िया चीज है इसको क्या पता चलेगा चुपचाप जब में डाल लो छले में डाल लो अपने घर जाके इस्तेमाल करते रहेंगे मुफ्त में इतनी चीज मिल रही है बढ़िया क्यों ना उठा लो ऐसे ऐसे विचार आ सकते हैं इसलिए उसको वहीं से शुरू से ही ब्रेक लगानी है मन में भी नहीं सोचना आगे इसको मन में भी ब्रेक लगाएंगे तो शास्त्र का नियम यह है कि दूसरे की संपत्ति बिना पूछे उपयोग नहीं कर सकते और यदि हम उपयोग करते हैं तो ये चोरी है स्तेयम मतलब चोरी सत्संग में जाते हैं लोग वहां अपनी चप्पल उतार दी और सत्संग में चले गए अंदर हॉल में अब बीच में इच्छा हुई थोड़ा बाहर जाने की बाथरूम जाने की तो वो उठ के आए और देखा मेरी चप्पल नहीं मिल रही तो दूसरे की चप्पल पहन के चले गए बाथरूम भी नहीं पूछे अब ये चोरी है लोग इसको चोरी नहीं मानते सोचते भी नहीं कि हम गलत कर रहे हैं सोचते भी नहीं वो कहते हैं हम क्या है दो मिनट की तो बात है अभी जाके वापस ला रख देंगे हम घर थोड़ी ले जा रहे हैं चप्पल वो ऐसा समझते हैं पर वो ये नहीं समझते कि शास्त्र में इसका भी निषेध है इसका भी मना है दूसरे की चप्पल आप तब तक प्रयोग नहीं कर सकते जब तक आप उससे स्वीकृति नहीं ले उससे पूछ नहीं ले तब तक आप उसका उपयोग नहीं कर सकते करते हैं तो चोरी एक व्यक्ति ने कहा जी इसमें क्या चोरी है हम दो मिनट में तो ला के रख ही देंगे इसमें क्या बुराई मैंने कहा कल्पना करो यही घटना आपके साथ हो जाए तो आपकी चप्पल कोई दूसरा ले गया बाथरूम में दो मिनट के लिए और संयोगवश आप भी उसी समय उठाए बाहर आपको या तो घर जाना है या कोई और कारण है कोई भी काम से आप भी सत्संग से बाहर उठाए और आपने देखा मेरी चप्पल गायब आप उसके बारे में क्या सोचेंगे जो आपकी चप्पल ले गया चोर है कैसे कैसे लोग आ जाते हैं सत्संग में है? आते हैं सत्संग सुनने और चप्पल चोर चोरी करके भाग जाते हैं तो आप भी तो उसको चोरी समझेंगे चाहे वो दो मिनट के लिए ले गया हो फिर आप ढूंढ ही रहे थे इतनी देर में वो बाथरूम से बाहर आ गया और उसने आपकी चप्पल रख दी और आपने देख लिया अच्छा ये आदमी ले गया था अब तो आपने आंख से देख लिया कि यही आदमी ले गया था आपकी चप्पल उसने लाके आपकी चप्पल रख दी घर नहीं ले गया चुराई नहीं आपकी भाषा में चुराई नहीं उसने वापस लाके रख दी और अपने अपनी अपनी आंख से देख लिया कि हाँ ये ले गया था अब आप सोचो उसको किस नजर से देखेंगे आप ये कैसा आदमी हमसे बिना पूछे हमारी चप्पल प्रयोग करता है क्या आप उसको अच्छी नजर से देखेंगे नहीं देखेंगे तो दूसरा भी आपको ऐसे ही देखेगा जब आप दूसरे की चप्पल उठाएंगे दो मिनट के लिए वो भी आपको ऐसे ही देखेगा कि चोर आदमी बिना पूछे हमारी चीज ले जाता है अब ये तो बाई चांस हमारे सामने आ गया और हमने देख लिया और हम इधर उधर होते और इसके मन में बेईमानी आ जाती तो ये ले भी जाता घर तो आपको वो अच्छा व्यक्ति नहीं मानेगा इसलिए शास्त्री ये कहता है कि अपनी चीज का उपयोग करो भगवान ने दो हाथ दिए बुद्धि दी मेहनत से कमाओ बुद्धि से कमाओ ईमानदारी से कमाओ और फिर जो कमाया उसमें से खाओ पियो उसका उपयोग करो हर आदमी स्वतंत्र है वो अपनी मेहनत से ही बुद्धिमत्ता से ईमानदारी से कमाता है अपनी अपनी चीजों का उपयोग करता है फिर यदि आपको कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि दूसरे की चीज हम प्रयोग कर लें थोड़ी देर के लिए तो फिर बिना पूछे प्रयोग नहीं कर सकते पहले 20-30 साल पहले 40 साल पहले थोड़ा पुराने जमाने में तो लोगों के पास साधन कम होते थे सब लोग इतना साधन सामान नहीं रखते थे संपत्ति भी कम होती थी अब तो बहुत पैसे बढ़ गए लोगों के पास तो जब साधन कम होते थे तो घर में कोई मेहमान अतिथि आ जाए तो पड़ोसियों से बर्तन मांग लाते थे कि साहब हमारे यहाँ मेहमान आए थोड़े बर्तन दो कुछ बिस्तर दो कुछ खटिया दो हमारे यहाँ जरूरत पड़ी है तो ऐसे एक दूसरे से पड़ोस से लेते रहते थे देते रहते थे और भोजन भी बना बना के भी वो एक दूसरे को भेजते रहते थे चलो आज ये कड़ी बनाई आप ये खाओ आज भजिया पकौड़े बनाए थोड़े आप खाओ ऐसे पड़ोस में बांटते रहते थे अब तो रिवाज कम हो गया बहुत कम रह गया अब तो सब अपना कमाते खाते अपना खा पी के सो जाते <laughs> कोई पड़ोसी को पूछता भी नहीं बहुत कम हो गई बात ये तो तब जो ये सहयोग लेना देना चलता था तो लोग मांग कर लेते थे पूछ कर लेते थे ऐसे बिना मांगे नहीं लेते थे वो अच्छी परंपरा थी अगर जरूरत पड़े तो मांग कर लो बिना मांगे नहीं बिना पूछे नहीं तो ये बात थी शास्त्र की शास्त्र कहता है बिना पूछे मत लो इसी को आगे कहते हैं तत्प्रतिषेध तो जो शास्त्र के विरुद्ध लेने वाली बात है उसका निषेध है मतलब शास्त्रानुकूल वस्तुओं का उपयोग करो पुनः अस्पृहारूपम अस्तयमिति तो उसका जो विरोध है निषेध है अर्थात मन में भी दूसरे की वस्तु लेने की इच्छा नहीं करना यह है अस्तेय मन में भी इच्छा नहीं करना व्यक्ति मन में इच्छा कैसे करता है वो गया अपने मित्र के यहां और देखा इसके पास एक दो तीन वॉइस रिकॉर्डर अरे तीन का क्या करेगा भाई एक तो मुझे गिफ्ट कर देना तीन तीन तो फालतू है इसके पास एक का उपयोग करेगा दो का कर लेगा अधिक से अधिक तीसरा क्यों रखा हुआ इसने तो मन में क्या सोचता है एक तो मुझे गिफ्ट कर दे तो अच्छी बात ये देखो मन में लालच आ गया ना बस ये चोरी यहां से शुरू होगी ये मानसिक चोरी मन में हम इच्छा करते हैं मुफ्त में मिल जाए लोभ करते हैं बिना खर्च किए फ्री में मिल जाए ये चोरी है और आजकल कंपनी वाले जो वस्तुओं का प्रचार करते हैं अपनी एड देते हैं सबको लालच मन में लालच पैदा करते हैं लोभी बना रहे हैं धीरे धीरे वो चोर बना देंगे सबको दो साबुन खरीदो तीसरा फ्री में अरे फ्री में क्यों दे रहे हो भाई फ्री में कोई देगा मूर्ख है क्या फ्री में क्यों देगा वो रोटी कहां से खाएगा प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो रोटी कैसे खाएगा दो साबुन का पैसा लेगा तीसरा फ्री में देगा तो रोटी कहां गुरुद्वारे में खाएगा कहां खाएगा पर वो लोगों को मूर्ख बनाते ऐसे लालच पैदा करते तीन खरीदो चौथा फ्री में दो खरीदो तीसरा फ्री में एक खरीदो एक फ्री में ये सब धोखेबाजी तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमको मन में भी लोभ की इच्छा नहीं रखनी चाहिए और मुफ्त में लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए मान लो आपके मित्र के पास तीन वॉइस रिकॉर्डर्स हैं और आपको भी एक आवश्यकता है आपको भी जरूरत है जरूरत हो तो बाजार से जाके खरीद लो उसके माल पे क्यों नजर रखते हो उसकी संपत्ति पे क्यों अपनी नीयत खराब करते हो ये करना गलत है अपना बाजार खुला है जाके खरीद लो और मान लो आपको पता नहीं है कहाँ से मिलता है कैसा मिलता है आपको जिस क्वालिटी का चाहिए वो मित्र के पास है तो या तो उससे पूछ लो और जाके खरीद लो और आपके पास टाइम नहीं है या आपको पहचान नहीं है आप खरीद नहीं सकते इतनी योग्यता नहीं है तो उसके पैसे कीमत पूछो कितनी कीमत है वो कीमत दो उसको लो भाई हमारे पैसे लो हमको एक वॉइस रिकॉर्डर ला दो ये हुई ना ईमानदारी की बात अपनी मेहनत से कमाओ और खाओ अपनी चीज का उपयोग करो दूसरे की संपत्ति पे नजर मत रखो ये है अस्तेय जी तो आ, कोई ऐसा जो अस्तेय का पालन नहीं करता है हम्म, हम्म। और हमने पकड़ लिया उसको ठीक है देख लिया ठीक है तो उसके बारे में योगियों को कैसी भावना बननी चाहिए जो न्यूट्रल हाँ। उदासीन उसको ये बताना चाहिए बताने योग्य हो तो बता भी सकते हैं हम्म। जैसे किसी बच्चे ने चप्पल उठाई सत्संग में और दो मिनट के लिए बाथरूम ले गया आपने देख लिया कि बच्चे ने भूल की बिना पूछे ले गया चप्पल तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि वो बच्चा हमारी बात को समझने योग्य है या नहीं मतलब इतना सिंसियर है वो हमारी बात को सुनेगा समझेगा विचार करेगा कुछ पालन भी करेगा लाभ उठाएगा ऐसा हो और आपका कुछ अधिकार भी हो थोड़ा परिचित भी हो बच्चा तब तो आप उसको बताएं देखो बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए दूसरे की चप्पल बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए ऐसे उसको बता सकते हैं फिर आपने देखा ये बच्चा अपना परिचित नहीं और हमारा इसको बोलने का अधिकार नहीं है और कुछ बोलेंगे भी तो इसके माता पिता हमसे लड़ने आ जाएंगे क्या बोला हमारे बेटे को तुमने क्या बोला तुम्हारा क्या लेना देना है ये हमारा बेटा हम उसको समझा लेंगे तुम अपना काम करो ऐसे लड़ाई झगड़े वाले हो तो वहां चुप रहना ठीक है वो हम बात नहीं करनी चाहिए अपना बच्चा हो तो जरूर बताना चाहिए क्या गलती करता है क्या ठीक करता है उस पर हर समय नजर रखनी चाहिए जहां जहां गलती करे उसको बताओ नहीं बेटा ऐसे दूसरे की चीज नहीं उठाना दूसरे की पेंसिल नहीं उठाना दूसरे का रबड़ नहीं उठाना दूसरे की नोटबुक नहीं उठाना बिना पूछे नहीं लेना चाहिए तो हम तुम्हें देंगे और अचानक चाहिए दो मिनट के लिए तो उससे पूछ करके लो बिना पूछे नहीं ऐसे बचपन से उसको सिखाते जाएंगे बार बार बताते जाएंगे तो वो फटाफट बुद्धिमान हो जाएगा और फटाफट सावधान हो जाएगा अच्छे काम करेगा तो इस प्रकार से ये देख करके हमें तब व्यवहार करना चाहिए बताएं नहीं बताएं कितना बताएं किसको बताएं सब व्यवहारिक स्तर पर परीक्षा पूर्वक करना चाहिए ठीक है जी आगे चलते हैं अच्छा ये तो था ना मन में मन में भी लेने की इच्छा नहीं करना दूसरा वाणी में वाणी से भी व्यवहार करते हैं तो वाणी से अस्तेय का पालन ऐसा होगा आपने कोई चीज दर्शन में पढ़ ली न्याय दर्शन में पढ़ ली कोई समस्या का समाधान आपको वहां मिल गया कि इस प्रश्न का ये उत्तर है फिर ऑफिस में मित्रों से बात चल रही थी किसी ने आपसे वो ऐसा ही प्रश्न पूछ लिया जिसका उत्तर आपने न्याय दर्शन में पढ़ा था तो उसने प्रश्न पूछ लिया आपको उत्तर मालूम था आपने उत्तर सुना दिया कि देखो इस समस्या का ये समाधान है वो कहेगा वाह आपने बहुत अच्छा बताया बल्कि हम्म, आप बहुत बुद्धिमान है बड़े बुद्धिमान है बड़े मेहनती हैं तो ऐसे आपने उस, उसने आपको प्रतिभाव दिया फीडबैक अब आपको वहां पर ईमानदारी दिखानी है अगर आपने कहा हाँ मैं बहुत मेहनत करता हूं बहुत घंटों घंटों दिमाग लगाता हूँ तब जाके ऐसे उत्तर ढूंढते हैं <laughs> ढूंढ के मिलते हैं ऐसे उत्तर तो वो जो सारी मेहनत की जो प्रशंसा थी वो आपने अपने हिस्से में डाल दी कि हाँ मेरी मेहनत का ये जवाब है मैंने खूब घंटों मेहनत की तब जाके ये उत्तर मिला है तो तो ये चोरी है हाँ ये समाधान आपका नहीं था ये समाधान था गौतम मुनि का न्याय दर्शनकार का उसने मेहनत की थी आपने उसकी की हुई मेहनत उसकी पुस्तक से पढ़ ली थी और उससे आपने लाभ उठाया और वही बात आपने उसको बता दी तो ये आपकी विद्या नहीं थी ये थी गौतम मुनि की और आपने अपने नाम से घोषित कर दी हाँ हाँ मेरी मेहनत है तो उसकी विद्या अपनी मेहनत के अपनी मेहनत के नाम से या विद्या के नाम से सुनाई ये चोरी हो गई ये वाणी की चोरी उसके ज्ञान को उसके शब्दों को आपने चुरा लिया और अपना बना के पेश कर दिया तो बाजार में डुप्लीकेट माल ऐसे ही तो होता है ना वो घटिया कंपनी का उठा लाते हैं और अपनी कंपनी का रेपर लगा के बेच देते हैं वो सब चोरी है तो ये सारी ये शारीरिक चोरी है ये वाणी की चोरी है दूसरे की बात अपने नाम से सुना देना अब मान लो उसने जब ये कहा कि आपने तो बहुत अच्छा उत्तर दिया बहुत बुद्धिमान है आप ऐसा कह दिया तब हमें क्या कहना चाहिए हमारी ईमानदारी अस्तेय का पालन कैसे होगा तब हम कहेंगे देखो ये तो ऋषियों की विद्या है ये वेदों की विद्या है ऋषियों की विद्या है हमने शास्त्रों में से पढ़ी है वो हमने आपको बताई ये हमारी नहीं है तो आप ईमानदार हैं आपने चोरी नहीं की उसकी बात उसके नाम से बताई ईश्वर की बात ईश्वर के नाम से बताई ऐसे बताने में कोई आपत्ति नहीं है वो बता सकते तो न्याय दर्शन की बात पढ़ी तो न्याय दर्शन के नाम से कह दो और योग दर्शन की पढ़ी तो योग दर्शन के नाम से कह दो सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ी तो महर्षि दयानंद के नाम से कह दो मनुस्मृति में पढ़ी तो मनु जी के नाम से कह दो वेद में पढ़ी तो वेद के नाम से कह दो और याद नहीं कहां से पढ़ी तो सबकी घुली मिली कह दो भाई ये तो ऋषियों की विद्या है वेदों की विद्या है हमने तो वहां से सीखी है वो आपको सुनाई हमारा कुछ नहीं है तो आप इस पाप से बच जाएंगे इस अपराध से बच जाएंगे चोरी करने से बच जाएंगे तो इस तरह से हमको व्यवहार में ध्यान देना चाहिए तो ये थी वाणी की चोरी और शारीरिक चोरी तो है ही दूसरे का सामान उठा लाए घर पे और फिर अपने खा भी गए इस्तेमाल कर लिया उसको बताया भी नहीं चोरी छुपे सब सामान चोरी कर लिया वो शारीरिक चोरी है तो ये तीन तरह की चोरी होती है इन तीनों से हमको बचना है ये है अस्ते अगली बात ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्यम गुप्तेन्द्रिय गुप्तेन्द्रिय उपस्थस्य उपस्थस्य संयम संयम ये चौथा यम है ब्रह्मचर्य उपस्थेन्द्रिय जो गुप्तेन्द्रिय है जिससे मूत्र विसर्जन करते हैं उसका संयम रखना उसका संयम रखना कंट्रोल रखना नियंत्रण रखना उसका दुरुपयोग नहीं करना तो ये ब्रह्मचर्य है आम क्रोध लोभ आदि आदि ये सब मानसिक रोग हैं इनमें से ये काम रोग है तो इसका भी नियंत्रण रखना है ये ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हमको औरों का भी नियंत्रण रखना पड़ेगा क्रोध का भी लोभ का भी ईर्ष्या द्वेष अभिमान ये सारे रोग आपस में एक दूसरे को बढ़ाते हैं क्रोध बढ़ेगा लोभ बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा कभी कुछ बढ़ेगा कभी कुछ बढ़ेगा वो एक दूसरे को उत्तेजित करते हैं तो एक को कंट्रोल करना हो तो बाकियों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा तब ठीक ठीक सारे नियंत्रण में रहेंगे तब ब्रह्मचर्य का पालन होगा तो इसके उपाय ऋषियों ने ऐसे बता रखे हैं कि ब्रह्मचर्य के पालन के लिए मन को और सभी इंद्रियों को नियंत्रण में रखो आंख को भी नियंत्रण में रखो कान को भी नियंत्रण में रखो रसना को भी नियंत्रण में रखो तो आप ये स्पर्श इंद्रिय वाले को भी नियंत्रण में रख सकते हैं सभी इंद्रियां आपस में संबंधित हैं एक दूसरे से संबंध रखती हैं अगर हम एक इंद्रिय के विषय का सुख लेते हैं तो हमारा उद्देश्य है सुख लेना आंख से हमने सुख लिया अच्छे अच्छे सुंदर दृश्य देखे अच्छी अच्छी पिक्चर देखी ठीक है तो आंख से जो रूप विषय का सुख लिया वो अन्य इंद्रियों को उत्तेजित करेगा कान से हमने सुख लिया अच्छे बढ़िया संगीत सुने तो जब कान से भी संगीत सुनने का उद्देश्य सुख लेना है तो आंख से भी कान से भी रसना से भी सभी इंद्रियों का उद्देश्य सुख लेना हो गया जब व्यक्ति एक इंद्रिय से सुख लेगा तो दूसरी से क्यों नहीं लेगा तो दूसरी से भी लेगा फिर तीसरी से भी लेगा सभी इंद्रियों से सुख लेगा वो सुख लेना उद्देश्य है तो यदि एक का नियंत्रण करेंगे इंद्रिय का तो बाकियों का भी कर पाएंगे एक का छूट दे दी तो बाकी भी छूट हो जाएगी तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सभी पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा तब ब्रह्मचर्य का पालन होगा इसलिए कहा भद्रम करणे भी श्रणयाम देवा भद्रम पश्य माक्षभिरी हे विद्वानों हम अपने कानों से अच्छी बात सुने आंख से अच्छे दृश्य देखें ताकि हमारे मन में दोष उत्पन्न ना हो इस तरह से सब इंद्रियों का नियंत्रण करते हुए हम ब्रह्मचर्य का पालन करने में समर्थ हो सकते हैं फिर इंद्रियों का नियंत्रण कैसे होगा वो मन से होगा यदि मन का नियंत्रण है ठीक तो इंद्रियों पर नियंत्रण हो पाएगा यदि मन का नियंत्रण ठीक नहीं है तो इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाएंगे मन का नियंत्रण करने से क्या तात्पर्य मन तो जड़ है सुनते और ये दर्शन यही कहता है शुरू से आखिर तक मन तो जड़ है तो जब जड़ वस्तु है फिर उसका नियंत्रण क्या करना वो तो हमेशा नियंत्रण में ही रहती है परंतु जड़ होते हुए भी हम ये कह रहे हैं कि मन का नियंत्रण करना है तो इसका अर्थ है कि हमको मन में जो विचार उठाने हैं वो संयम पूर्वक उठाने मन का जो संचालन करना है वो बुद्धिमत्ता से करना है एक व्यक्ति कार चलाता है और 150-60 की स्पीड पे चलाता है फिर सामने स्पीड ब्रेकर आता है अब वो ब्रेक मारना चाहता है पर रुकती नहीं 160 की स्पीड में चलती हुई कार की थोड़ी एकदम थोड़ी रुक जाएगी अब जब स्पीड ब्रेकर पे कार उछलती है फिर वो चिल्लाता है ये कार बहुत खराब है ये मानती नहीं मैं ब्रेक लगाना चाहता हूं ये रुकती नहीं ये तो बहुत जोर से कूदती है उछलती है अब बताओ क्या कार का नियंत्रण कार करेगी या हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे फिर कार को क्यों बोल रहे हैं ये कार मानती नहीं कार बहुत खराब है कार बहुत उछलती है तो वास्तव में कार का नियंत्रण हमें ही करना है हमको सोच समझ के कार चलानी है सड़क को देख के चलानी है सीधी सपाट सड़क है तो तेज चलाओ और तेज भी एक सीमा तक चलाओ सत्तर अस्सी तक चलाओ ताकि हम उसको नियंत्रित कर सकें कोई स्पीड ब्रेकर आए कोई खड्डा आ जाए कोई कुत्ता आ जाए कोई मनुष्य आ जाए सामने आ जाए अचानक तो हम ब्रेक लगा के उसका नियंत्रण कर सकें जब हम गलत तरीके से कार चलाते हैं तब वो हमारी ही चलाई हुई कार हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो ठीक इसी तरह से मन को हम ही चलाते हैं और गलत तरीके से चलाते हैं तब वो हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो यहां जो हम कह रहे हैं कि मन का नियंत्रण करो उसका तात्पर्य यह है कि मन को ठीक तरह से चलाओ चलाएंगे हम नियंत्रण भी हम ही करेंगे तो ठीक दिशा में ठीक गति से ठीक ढंग से विचार करेंगे तो आवश्यकता पड़ने पर हम उसका नियंत्रण कर पाएंगे और मन का नियंत्रण कर लिया तो फिर इंद्रियों का भी हो जाएगा इंद्रियां तो मन के पीछे चलती मन में इच्छा उठती है और इंद्रियां शुरू हो जाती बस इच्छा उठाने की देर इंद्रिय काम करना शुरू कर देती है मन सभी इंद्रियों को प्रेरित करता है पहले मन में इच्छा होगी चलो कोई टीवी सीरियल देख लेते पहले इच्छा होती फिर टीवी ऑन करेंगे फिर आंख से देखेंगे अगर मन में इच्छा ही नहीं है तो टीवी ऑन नहीं करेंगे तो आंख से देखेंगे ही नहीं इससे पता चलता है इंद्रियां तो मन को फॉलो करती मन के पीछे चलती है तो मूल बात है मन का नियंत्रण करना मन नियंत्रण में रहेगा तो इंद्रियां भी नियंत्रण में रहेंगी तो हम ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे अब प्रश्न है कि मन का नियंत्रण कैसे करें इच्छाओं को कंट्रोल कैसे करें क्योंकि इच्छा अगर कंट्रोल में है तो इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी और ब्रह्मचर्य का पालन ठीक हो जाएगा और मन में जो हम इच्छाएं उठा रहे हैं यदि वो नियंत्रण में नहीं है तो विचार तेज चलेंगे इंद्रियां भी खूब भागेंगी और गड़बड़ हो जाएगी अब इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मन का नियंत्रण मन में जो इच्छाएं उठती हैं उसको कैसे रोके उसका उत्तर है कि जहां जहां हमको सुख दिख रहा है जिस जिस सुख को भोगने की इच्छा पैदा हो रही है मन में वहां वहां सुख के साथ साथ दुख को भी देखे केवल सुख नहीं हो सुख के साथ साथ दुख भी है सुख तो है बीस परसेंट और दुख है अस्सी परसेंट जब इस दृष्टि से देखेंगे तो इच्छा कम हो जाएगी इच्छा नियंत्रण में आ जाएगी ये है उसका रास्ता तो ब्रह्मचर्य का पालन यदि कोई करना चाहता है तो उसको संसार में सुख नहीं देखना उसको दुख देखना खाने में पीने में घूमने में देखने में सुनने में स्पर्श में कोई भी इंद्रिय हो सभी इंद्रियों के अंदर सुख के साथ दुख देखें सुख कम देखें दुख अधिक देखें तो इच्छा घट जाएगी इच्छा घट जाएगी तो मन और इंद्रियों पर संयम हो जाएगा ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे आज का वातावरण इससे बिल्कुल उल्टा है सौ परसेंट उल्टा है आज टेलीविजन में देखो कोई भी एड देखो कैसे चमकाते हैं ये क्रीम ये पाउडर <laughs> ये फलाना ये साबुन बड़ी अच्छी चमकती है त्वचा है और रंग गोरा हो जाता है एक ने कहा क्या है वो fair and lovely cream fair and lovely cream लगाओ एक हफ्ते में रंग गोरा हो जाता है तो किसी कवि ने कहा मजाक उड़ाने वाले ने उसने कहा ये क्रीम जो है तमिलनाडु में भेज दो एक हफ्ते में सारा तमिलनाडु कश्मीर बन जाएगा क्रीम लगाने से गोरा होता हो तो ये साउथ इंडिया वाले सारे गोरे नहीं हो जाएंगे यहाँ सारी क्रीम यहाँ भेज दो सब लोग लगाएंगे सारे कश्मीरी हो जाएंगे गोरे गोरे हो जाएंगे पर वो दिखाते ऐसे ही साबुन की एड क्रीम की एड और पता नहीं क्या क्या सारा दिन यही दिखाते रहते हैं तो ये ये इच्छाओं को भड़काते हैं ये सुख दिखाते हैं कि हम सुंदर दिखेंगे हम खाएंगे पिएंगे वो कोई क्या तेल की आती है एड सफोला सफोला कोई भी उसमें तेल में पकौड़े बनाए और खाए वाह जैसे आज स्वर्ग मिल गया हो ऐसा खाना कभी खाया ही नहीं ऐसा ऐसा प्रदर्शन करेंगे जैसे कभी ऐसा खाना खाया ही नहीं तो कभी तेल का विज्ञापन कभी घी का विज्ञापन कभी क्रीम का कभी साबुन का कभी पाउडर का कभी कुछ तो ये सारा उल्टा वातावरण ये इच्छाओं को बढ़ाने वाला है ये काम वासना को बढ़ाने वाला है क्रोध को बढ़ाने वाला है लोभ को बढ़ाने वाला है तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे सुनेंगे तो ये ब्रह्मचर्य के विपरीत होगा फिर मन इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाएंगे वो एक परफ्यूम का ऐड आती है वो एक पुरुष जो है यूं परफ्यूम लगाता है जोर से मारता है खूब सारी और फिर वो बाजार में निकलता है तो सब लोग क्या बात जैसे स्वर्ग में आ गए और और अच्छा देखो मूर्खता देखो वो दिखा रहा है कि मैं परफ्यूम मार रहा हूं और देखने वाले देख भी रहे अपनी आंख से देख रहे हैं ये परफ्यूम मार रहा और जो खुशबू आ रही है वो परफ्यूम की खुशबू है या शरीर की है परफ्यूम और वो क्या समझ रहे हैं शरीर शरीर की कितनी अविद्या है कितनी मूर्खता है आंख से देख करके भी फंस रहे हैं उसमें अविद्या में ये खुशबू उसके शरीर की नहीं है और वो शरीर के पीछे पागल हो रहे हैं तो इस प्रकार से ये सारा वातावरण उल्टा है जो काम क्रोध लोगों को बढ़ाने वाला है इससे हमको बच के रहना चाहिए कोशिश करें कि ऐसी चीजों से बचें कम देखें पहली बात देखें ही कम बहुत मजबूरी हो समाचार देख रहे हैं बीच में ऐड आ गई चलो देख लिया देख लिया कोई बात नहीं तो देख लिया तो फिर इस एंगल से देखें कि ये सब मूर्खता है अविद्या है ये खुशबू तो परफ्यूम की है व्यक्ति की नहीं और इस खुशबू में भी कितना सुख है पांच मिनट का दो मिनट का दो मिनट खुशबू आएगी पांच मिनट आएगी उसके बाद खत्म खाएंगे पिएंगे उसका सुख लेंगे पांच दस मिनट सुख मिलेगा उसके बाद खत्म और फिर जब नहीं मिलेगा तब पता चलेगा कितना दुख है इसमें तो इस तरह से उसमें सुख जो है वो क्षणिक है लंबा टिकने वाला नहीं है और फिर एक सुख लिया तो चार दुख भी भोगने पड़ेंगे परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोध दुख तो ये चार चार दुख भोगने पड़ेंगे ऐसी दृष्टि से देखें संसार को सभी जगह तो आपको फालतू इच्छाएं नहीं उठेंगी बस जीने मात्र के लिए खा लेंगे पी लेंगे बैठ जाएंगे सो जाएंगे कार में ट्रेन में हवाई जहाज में यात्रा भी कर लेंगे अपने जीवन रक्षा के लिए समाज की सेवा के लिए परोपकार के लिए कार्य सिद्धि के लिए इन चीजों का उपयोग कर लेंगे तो मन पर संयम रहेगा इंद्रियों पर संयम रहेगा नियंत्रण रहेगा तब ब्रह्मचर्य का पालन होगा ऐसे करना चाहिए यह है चौथी बात ब्रह्मचर्य अब पांचवी बात है अपरिग्रह उसकी बात शुरू करते हैं विषयाणाम विषयाणाम अर्जन अर्जन रक्षण रक्षण क्षय क्षय संग संग हिंसा हिंसा दोष दोष दर्शनात् दर्शनात् अस्वीकरण अस्वीकरण अपरिग्रह अपरिग्रह इति एते इति एते यमा यमा पांचवा यम है अपरिग्रह कहते हैं विषयाणाम जो विषय है रूप रस गंध शब्द स्पर्श पांच विषय इन विषयों का अर्थात ऐसी वस्तुओं का जिनमें ये रूप रसगंध आदि विषय रहते हैं तो विषय अकेला तो रहता नहीं किसी न किसी द्रव्य में रहेगा तो यहां वक्ता का तात्पर्य है कि रूप रसगंध आदि विषयों वाले जो पदार्थ हैं जो वस्तुएं हैं जिनसे हम रूप रसगंध का सुख लेते हैं वो वस्तुएं उन वस्तुओं का पांच दोष देखो उन वस्तुओं में एक है अर्जन दोष कमाना अर्जन माने कमाना अर्निंग पैसे कमाओ हमको कार चाहिए बंगला चाहिए बढ़िया गाड़ी चाहिए होंडा सिटी चाहिए होंडा एकॉर्ड चाहिए फिर आगे बीएमडब्ल्यू चाहिए फिर मर्सिडीज चाहिए बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां चाहिए क्यों सुख लेना तो यदि सुख लेने के लिए इस तरह से हम ऊंची ऊंची इच्छाएं करेंगे ऊंची ऊंची वस्तुएं खरीदना चाहेंगे अब सेंट्रो कार में भी चार पहिए और होंडा एकॉर्ड में भी चार पहिए सेंट्रो मारुति ये दो चार लाख की पांच लाख की छह लाख की मिल जाती है होंडा एकॉर्ड बीस लाख की मिलती है फिर उसके बाद मर्सिडीज खरीदो तो पचास लाख की मिलती है पचपन लाख की सत्तर लाख की बीएमडब्ल्यू खरीदो और एक करोड़ की दो करोड़ की तो उसमें भी चार पही है इसमें भी चार पही उसमें भी चार सवारी बैठेगी इसमें भी चार पांच बैठ जाएगी और क्या होगा तो जब हम पांच छह लाख की कार से काम चला सकते हैं तो दो करोड़ की तीन करोड़ की फरारी क्यों खरीदी इतना फालतू खर्च क्यों करे अब वो इतना खर्च करने के लिए कमाई करो पहले तो तो खूब मेहनत करनी पड़ती है बारह बारह घंटे पंद्रह पंद्रह घंटे लोग मेहनत करते हैं तब जाके चार पैसे मिलते हैं तो कमाने में मेहनत करनी पड़ेगी समय खर्च होगा शक्ति नष्ट होगी ये पहला दोष आवश्यकता से अधिक कमाने में ये पहली समस्या समय और शक्ति जाएगा अर्जन दोष दूसरा रक्षण दोष अब करा ली कमा तो लिया आपने दो करोड़ पांच करोड़ बीस करोड़ पचास करोड़ कमा लिया अब उसकी रक्षा करो रक्षा करने में उससे भी ज्यादा झंझट कमाने से भी कमाना एक झंझट फिर उसकी सुरक्षा करो वो दूसरा बड़ा झंझट कई लोग मांगने आ जाएंगे उधार लाओ जी आपके पास बहुत पैसे हैं थोड़े हमको भी दे दो <laughs> हमें भी जरूरत है धंधे में तकलीफ आ गई है थोड़ा उधार दे दो अब उधार दो तो वापस नहीं आएगा और नहीं दो तो रिश्ता बिगड़ेगा फिर वो नाराज होगा साहब देखो इतने पैसे हैं फिर भी नहीं देते कंजूस है फलाना ऐसे ऐसे गाली देंगे आरोप लगाएंगे बदनाम करेंगे झगड़ा करेंगे टोन मारेंगे तंग करेंगे ऐसे ऐसे फिर कोई ज्यादा संपत्ति है तो चोरों की भी नजर रहती है किसके पास माल है वो सेठ के पीछे लग जाते हैं बस में ट्रेन में देखो चोरों को पता लग जाए इसकी जेब में माल है वो उसके पीछे लग जाएंगे कितने ही सैकड़ों मील तक उसका पीछा करेंगे जब मौका मिलेगा फट चुरा लेंगे तो कितने सेठों को गोली मार देते हैं अपहरण कर ले जाते हैं पैसा लाओ तो सुरक्षा करना भी एक समस्या है वो दूसरा झंझट है तीसरा है संग दोष ये क्षय चौथा तीसरा है क्षय क्षय का अर्थ चोरी हो गई सरकार ने टैक्स लगा दिए चोर चोरी करके ले गए कोई डाकू लूट के ले गए तो उसमें भी कष्ट होता है फिर चौथा है संग दोष संग दोष का मतलब है उसको बहुत पैसे कमा लिए फिर आदत खराब हो गई फजूल खर्च करने की फालतू खर्च करने की जैसे बीस रुपए से भी काम चल सकता है तो पचास रुपए खर्च कर देगा पचास से काम चलता है तो ढाई सौ खर्च कर देगा बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें खरीदेगा तो इस तरह से वो आदत पड़ जाती है फालतू खर्च करने की चीजों का सुख लेने की आदत पड़ जाती है आज तो मिल रही है कल व्यापार में घाटा आ गया पैसे नहीं रहे कम पड़ गए अब देखना दुख होगा हम चाहते हैं उसी ऊंची क्वालिटी की चीज अब वो मिलती नहीं पैसे नहीं आज घाटे में आ गए कई लोगों के ऐसे होते हैं ना पैसे घट जाते हैं तो वो बाद में दुखी होते हैं तो ये संग दोष कहलाता है पांचवा है हिंसा दोष फिर जब बड़ा सेठ बनना हो करोड़पति अरबपति बनना हो तो फिर मजदूरों का शोषण भी करना पड़ता है उनकी मजदूरी मार लेते हैं पूरी मेहनत से पैसा नहीं देते उसका जितनी मेहनत का पैसा बनता है उतना नहीं देते और काम ज्यादा लेते हैं पैसा कम देते हैं तो ये हिंसा कहलाती है अन्याय है तो इसका भी पाप लगता है तो इस तरह से आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति आदि वस्तुएं जमा करेंगे कमाएंगे तो इसमें पांच दोष देखना चाहिए इस तरह के पांच दोष देख करके अस्वीकरण अधिक स्वीकार नहीं करना चाहिए बस धन कमाओ उतना कमाओ जितने में आपका गुजारा चल जाए गुजारे से मतलब उसको समझ लें अच्छी तरह हमारा खाना पीना ठीक से चल जाए कपड़ा ठीक मिल जाए मकान भी ठीक हो कार भी हो यात्रा के लिए साधन भी चाहिए telephone mobile phone TV computer जो आजकल नेसेसिटीज हैं ये तो नेसेसिटीज हैं अनिवार्य चीज है इसके बिना तो आज जीना मुश्किल है तो जितना भी हमारा स्तर है जीने का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है जो जिस तरह का हमारा जॉब है जिस तरह की हम सोसाइटी में रहते हैं जिस तरह का हमारा समाज है तो उस समाज के स्तर को देखते हुए हमारा खाना पीना किराया भाड़ा कपड़ा मोटर गाड़ी सोना चांदी काम चलाओ इतना हमारे पास हो जाए इतना कमा लो फिर बच्चों की पढ़ाई है उसका खर्चा कर लो वो जमा कर लो वो भी कमाओ फिर महंगाई आती है आगे महंगाई बढ़ती है उसके लिए भी कमा कमाना पड़ेगा फिर बच्चों की शादी वादी करनी है उसके लिए भी खर्चा चाहिए वो भी कमा लो फिर कल हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम बैठे बैठे खाएंगे तब तो नौकरी थोड़ी करेंगे तो रिटायर हो जाने के बाद का भी खर्चा चाहिए वो भी कमा लो फिर बीमार हो जाएंगे कहीं ऑपरेशन भी करना पड़ जाए कोई दो चार लाख पांच दस लाख का खर्चा आ जाए बीमारी बीमारी का वो भी गिनना चाहिए आजकल वो भी हो सकता है कोई पता थोड़ी कब क्या शरीर में रोग आ जाए तो बीमारी का इलाज का खर्चा वो भी जमा करो फिर कोई अतिथि मेहमान आते हैं उनको भी खिलाना पिलाना उनकी रक्षा सेवा करनी पड़ती है वो भी जमा करो फिर कहीं संस्था में दान देना है वो भी देना पड़ता है गृहस्थ व्यक्ति कमाता है तो दान भी देता है वो ही दान देगा और कौन देगा और तो ग्राहक कमाते नहीं तो दो चार रुपया दान देना वो भी कमाओ तो ऐसे सारी गिनती करना कि हमारे जीवन को ठीक ठाक व्यवस्थित चलाने के लिए खाने पीने के लिए भविष्य के लिए बीमारी के लिए चिकित्सा के लिए दान देने के लिए अतिथि के लिए कितना पैसा चाहिए सारे गिनती करो उसका एक टारगेट बनाओ बस उतना पैसा कमा लो ये है आवश्यकता इससे आगे फिर फालतू है फिर वो बेकार की चीजें हैं वो परेशान करेंगी आपको टेंशन पैदा करेंगी उसमें ये पांच दोष देखें और आवश्यकता से अधिक न कमाएं उस पैसे को क्यों कमाएं जिसको ना हम खुद खर्च कर पाएंगे ना हम दान दे पाएंगे फालतू बैंक में सड़ता रहेगा और जमा कर करके मर जाएंगे उसके लिए इतना समय और शक्ति क्यों नष्ट कर उतना समय बचाओ उतनी शक्ति बचाओ बस जितना जरूरत का है उतना कमाओ और बाकी जो समय बचे शक्ति बचे बुद्धि बचे उसको योगाभ्यास में लगाओ शरीर रक्षा में लगाओ व्यायाम में लगाओ स्वाध्याय में लगाओ सत्संग में लगाओ परोपकार में लगाओ समाज सेवा में लगाओ इन पुण्य कर्मों में लगाओ ध्यान उपासना में लगाओ ताकि हम मोक्ष तक पहुंच सके आज व्यक्ति को यह कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको शुरू से आखिर तक सिर्फ पैसा बुढ़ापे में अस्सी साल में भी पैसा नब्बे साल में भी पैसा चाहिए उसको नब्बे साल की पचानवे साल की उम्र वालों को मैंने देखा है दुकान पर बैठे अपनी आंख से देखा है नब्बे वाले वो दुकान पर बैठे हैं व्यापार कर रहे हैं अपना पैसा ब्याज पर दे रहे हैं पचानवे साल की उम्र में <laughs> अभी भी ब्याज कमा रहे हैं बताओ उनको अभी भी समझ में नहीं आई कल सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे बिस्तर से कोई पता नहीं और ब्याज कमा रहे हैं अभी भी अब तो पैसा छोड़ो अब तो कुछ ध्यान करो परमात्मा का कोई स्वाध्याय करो कोई सत्संग करो पर कोई विचार ही नहीं लोग उनको अगला जन्म होगा दिखता ही नहीं सब यहीं छोड़ना पड़ेगा वो समझ ही नहीं आ रहा तो ये परिस्थिति अच्छी नहीं है तो ऋषि लोग कहते हैं अधिक मत कमाओ जितना जीवन गुजारे के लिए हो जाए उतना कमाओ और फिर बाकी अपना योगाभ्यास में इन कामों में समय लगाओ शक्ति लगाओ तब हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे इस प्रकार से अधिक संग्रह न करना ये अपरिग्रह कहलाता है ग्रह का अर्थ है ग्रहण करना परि का अर्थ है चारों ओर से परिग्रह का अर्थ हुआ चारों ओर से ग्रहण करना खूब जमा करना और अपरिग्रह अधिक नहीं करना जितनी आवश्यकता हो बस उतना ही करना अधिक जमा नहीं करना ये अपरिग्रह कहलाता है तो ये पांच यम हुए अंत में लिखा है इति एते यमा ये पांच यम कहलाते इनका पालन करना चाहिए ये आठ अंगों में सबसे पहला अंग है इनका पालन करेंगे तो हमारी अविद्या दूर होती जाएगी विद्या बढ़ती जाएगी अशुद्धि का नाश होगा और ज्ञान की दीप्ति होगी ज्ञान का विकास होगा बढ़े बोलिए ये अपरिग्रह मन से और वाणी से अपरिग्रह तो मन में अधिक संग्रह की इच्छा करना कि मेरे पास और पैसा हो जाए और हो जाए और हो जाए ये परिग्रह हो गया तो मन में भी इच्छा नहीं करना ये मानसिक अपरिग्रह हुआ बस जरूरत के हिसाब से देखो इतना है ठीक है हो गया वाणी से भी ऐसी बातें करना लोगों से कि भाई थोड़ा और मिल जाए थोड़ा और मिल जाए तो अच्छा है चलो ये कंपनी बदल देते हैं वहां इनकम ज्यादा होगी वहां सैलरी ज्यादा मिलेगी विदेश का दूसरी कंपनी है उसमें जॉब कर लेते हैं कुछ और अधिक लाभ हो जाएगा तो ये वाणी से भी बोलते रहना लोगों से कहते रहना भाई थोड़ा और बढ़ा दो सैलरी और बढ़ा दो तो ये वाणी का परिग्रह हो जाएगा और शरीर से फिर वैसा बदलते रहना देश विदेश में भागते रहना चलो भाई वहां कनाडा में चलते हैं वहां इनकम ज्यादा होगी ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं वहां धंधा शुरू करेंगे वहां इनकम अच्छी होगी ये शारीरिक परिग्रह हो जाएगा तो इस तरह से नहीं करना मानसिक भी वाणी का भी शरीर का भी उचित ठीक ठीक जैसा मिल जाए मेहनत के हिसाब से इस तरह से संयम रखना संतोष रखना ये फिर अपरिग्रह कहलाएगा आगे चले चलिए सूत्री कत्तीस की भूमिका में दो शब्द हैं ते तु ते तु ते का मतलब वे पांच यम तु तो वे पांच यम तो क्या कहलाते हैं उसको बताएंगे अगले सूत्र में सूत्र इकतीस बोलिए जाति जाति देश देश काल काल समय समय अनवच्छिन्ना अनवच्छिन्ना सार्वभौमा सार्वभौमा महाव्रतम महाव्रतम तो वे जो पांच यम हैं वे महाव्रतम महान व्रत हैं ये बहुत ऊंचे संकल्प हैं महान व्रत हैं जीवन को महान बनाने वाले हैं इसलिए इनका नाम है महाव्रतम व्रत का अर्थ है संकल्प तो इन पांच यमों को जीवन में धारण करना चाहिए इनका पालन करने का संकल्प लेना चाहिए और खूब अच्छी तरह से इनका पालन करना चाहिए कैसे करना चाहिए वो बताते हैं इस सूत्र में जाति देश काल और समय ये चार शब्द हैं आगे जो शब्द है अनवच्छिन्ना ये चारों के साथ जुड़ेगा अवच्छिन्न का अर्थ है सीमित अवच्छिन्न सीमित अन अवच्छिन्न ये उल्टा हो गया नंज पुरुष समास है अन अवच्छिन्न असीमित इन चार की सीमाओं में बंद करके काम नहीं करना सीमाओं से ऊपर उठ के काम करना तो जाति देश काल और समय की सीमाओं से रहित इनका पालन करना है सार्वभौमा सभी भूमियों में सभी अवस्थाओं में प्रत्येक परिस्थिति में इनका पालन करना है इसमें कहीं कोई छूटछाट नहीं है किसी भी परिस्थिति में इसमें कोई कंसेशन नहीं है पांचों यमों का पालन हमेशा करना है सदा करना है सब जगह करना है इनका नाम महाव्रतम है ये सूत्र का अर्थ हुआ कैसे करना है वो आगे भाषा में पढ़ते हैं तत्र अहिंसा तत्र अहिंसा जाति अवच्छिन्ना जाति अवच्छिन्ना एक अहिंसा का उदाहरण लेके समझाएंगे पांच यमों में से एक का उदाहरण लिया अहिंसा जाति अवच्छिन्ना जाति में सीमित कोई जाति की सीमा बनाकर यदि अहिंसा का पालन करे तो वो कैसे करेगा वो ऐसे करेगा मत्स्य वधकस्य मत्स्य वधकस्य मत्स्येषु एव मत्स्येषु एव न अन्यत्र न अन्यत्र हिंसा हिंसा समुद्र में मछली पकड़ने वाले होते हैं मछुआरे आप जानते ही सौरभ समुद्र किनारे पर वो मछुआरे मछली पकड़ते हैं उनको मारते हैं व्यापार करते हैं बेचते हैं उससे उनका खर्चा खाना पीना चलता है तो जो मछुआरे हैं मत्स्य वधकस्य मच्छी मारने वाले उनका ये नियम बना रखा उन्होंने कि हम बस मच्छी मारेंगे गाय को नहीं मारेंगे भेड़ बकरी को नहीं मारेंगे गधे को नहीं मारेंगे हाथी शेर को नहीं मारेंगे बस मच्छी मारेंगे बाकियों को तो नहीं मारेंगे इनको मारेंगे बाकियों के साथ अहिंसा और मच्छी के साथ हिंसा तो ऐसी अहिंसा नहीं चलेगी सभी जातियों के साथ अहिंसा का पालन करना कोई छूट नहीं कि हम मच्छी का व्यापार करें ना छूट नहीं है तो इस प्रकार से जो मच्छी मारने वाला है मतलब होती थी चोरी तब भी होती थी झूठ तब भी बोलते थे मांस तब भी खाते थे कम होता था तभी तो वेद में लिखा है प्राणियों की हिंसा मत करो गांव मा हिंसी तो गाय को तब भी मारते थे लोग अश्वम मा हिंसी अभिम हिंसी वेद में लिखा है फिर आगे वैदिक शास्त्रों में लिखा है मांस आ मांस मत खाओ तो ये तो अनादिकाल से चल रहा है कोई आज कोई नया फैशन नहीं हुआ है कि लोग गाय को मारने लगे तो अनादिकाल से चल रहा है पहले भी चलता था अब भी चल रहा है आगे भी चलेगा अगली सृष्टि में भी ईश्वर यही वेद का ज्ञान देगा यही चार वेद होंगे तब भी वो कहेगा कि मांस नहीं खाना गाय घोड़े को नहीं मारना तो वही जीवात्मा है वही प्रकृति है वही ईश्वर है तीनों वही के वही नया तो कुछ भी नहीं है जीवात्मा की प्रवृत्तियां वही की वही रहती हैं और ये अनादिकाल से चल रही इसलिए वेद भी वही के वही रहते हैं हमेशा वही बातें बताई जाती हैं लोग कहते हैं गुरु जी आप जब भी आते हो वही तीन बात सुनाते हो ईश्वर जी और प्रकृति कोई चौथी बात सुनाते नहीं आप मैंने कहा चौथी है ही नहीं तो सुनाई कि आप वही पुरानी पुरानी बात सुनाते हो मैंने कहा आप भी वही पुरानी गेहूं की रोटी खिलाते हो <laughs> आप भी तो वही रोटी खिलाते हो मुझे वही चावल खिलाते हो वही मूंग की दाल खिलाते हो है वही तोरी की सब्जी खिलाते हो वही खिचड़ी खिलाते हो आप भी तो वही पुरानी चीज खिलाते हो आप बताओ नई चीज कहां से लाओगे तो सारी सृष्टि वही है तीन वस्तु अनादि है वो तीन ही रहेंगी ना चार होंगी ना दो होंगी इसी को समझना तो, तो हर बार बढ़ता रहता है वो बढ़ता घटता हमको दिखता है कभी कभी कुछ बढ़ता है कभी कभी कुछ घटता भी है तो ये तो होता रहता है कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है रहेगा वही ईश्वर दूसरा नया नहीं आएगा हम जीवात्मा भी अनादिकाल से हम भी कोई बदल नहीं जाएंगे सारी जीवात्मा एक जैसी हैं सब एक जैसी रहेंगी प्रकृति भी वही रहेगी ये चेंज होने वाली नहीं है तो कर्म भी वही रहेंगे फल भी वही रहेंगे सब कुछ वही रहेगा कुछ बदलने वाला नहीं हमको सिर्फ ये समझना है कि ये दुनिया कब से चल रही है क्यों चल रही है कौन चला रहा है हम कौन है कहां से आए कहां जाएंगे हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बस इतना ही समझना जिसको समझ में आएगा वो ये झूठ चोरी हिंसा बंद कर देगा वो अच्छे काम करेगा यम नियम का पालन करेगा अपना ध्यान समाधि लगाएगा और मोक्ष में जाएगा बस इतना ही करना एक बार मोक्ष में गए तो अरबों खरबों वर्षों तक शांति वहां आनंद मिलेगा झंझट खत्म और जब वहां अपना आनंद पूरा भोग लेंगे फिर वापिस आ जाएंगे और फिर दोबारा नए शुभ कर्म करेंगे मोक्ष के फिर मोक्ष में जाएंगे बस यही चक्कर चलेगा कभी वहां चले जाएंगे कभी यहां आ जाएंगे आप कभी घर चले जाते हैं कभी ऑफिस चले जाते हैं रोज ही तो जाते हैं ऑफिस फिर वापिस आ जाते हैं लोग कहते हैं साहब मोक्ष में जाएंगे फिर वापस आना पड़ेगा हमने कहा क्यों नहीं आना पड़ेगा बोले फिर जाने का लाभ क्या हम कहते हैं आप सुबह ऑफिस जाते हैं बोले हाँ जाते हैं तो शाम को वापिस घर आते हैं बोले आते हैं तो मैंने कहा आपको पता है कि शाम को घर वापस आना है तो क्यों गए थे ऑफिस <laughs> आपको भी तो पता था ना शाम को घर वापस आना है तो ऑफिस क्यों गए तो भी आप जाते हैं तो जैसे आप ऑफिस जाते हैं और फिर घर आ जाते हैं ऐसे ही हम मोक्ष में जाएंगे फिर वापिस आ जाएंगे <laughs> फिर जाएंगे फिर आ जाएंगे फिर जाएंगे फिर आ जाएंगे आप रोज ऑफिस जाते हैं हम भी मोक्ष में जाएंगे हमारा ऑफिस वही है <laughs> हम अपने ऑफिस जाएंगे आप अपने ऑफिस जाओ अलग अलग बात को समझाने के लिए अलग अलग दृष्टांत होते हैं अलग अलग प्रसंग में ये दृष्टांत उल्टे भी हो जाते हैं आज मैंने ये बात समझाने के लिए आपको मोक्ष को ऑफिस के रूप में बताया कि आप अपने ऑफिस जाते हैं हम अपने ऑफिस जाएंगे मोक्ष हमारा ऑफिस है और आपका ऑफिस है कौन सा एनसीआई एनआईसी तो आपका एनआईसी ऑफिस है हमारा मोक्ष ऑफिस है अब मैंने इसको मोक्ष को ऑफिस के नाम से कहा एक अलग प्रसंग में एक अलग दृष्टांत अवसर पर हम इसको उलट करके इसको घर बना देंगे उल्टा कर देंगे हम ये कहेंगे मोक्ष हमारा घर है और ये हमारा ऑफिस है दुनिया दुनिया ऑफिस है और मोक्ष घर है तब हम ऐसा उल्टा भी कर सकते हैं तो प्रसंग को देखना पड़ेगा कब कहा क्या बात कही जा रही है चलिए तो जाति की बात चल रही थी मत्स्य से जो मछली मारता है मत्स्यसु एवं हिंसा वो कहता है मैं मच्छी को तो हिंसा करूंगा मारूंगा अन्यत्र न बाकियों को नहीं मारूंगा गाय घोड़े को नहीं मारूंगा तो कहते हैं ये कौन सी अहिंसा हिंसा हुई जाति की सीमा में बंद कर तो ऐसा नहीं करना है ऐसा नहीं चलेगा अहिंसा का पालन करना है सभी जातियों में करना मनुष्य को भी नहीं मारेंगे गाय को भी नहीं मारेंगे घोड़े को भी नहीं मारेंगे और शेर को भी नहीं मारेंगे हिरण को भी नहीं मारेंगे सांप भी नहीं मारेंगे मछली भी नहीं मारेंगे किसी को नहीं मारना सभी जातियों में अहिंसा का पालन करना है ये जाति का उदाहरण हो दूसरा सैव सैव देश अवच्छिन्ना देश अवच्छिन्ना न तीर्थे न तीर्थे हनिष्यामी हनिष्यामी तीर्थ कहते हैं पवित्र स्थान को तो पुराने समय में जो तीर्थ होते थे कोई मंदिर है कोई गुरुकुल है कोई अच्छा धार्मिक स्थल है जहां अच्छी बड़ी बड़ी सभाएं होती उसको तीर्थ कहते थे क्योंकि वहां पर गुरुजन और विद्वान लोग बैठ करके हमको दुखों से पार लगाते थे दुख से तरा देते थे तो दुख से तरा दे जो उसका नाम है तीर्थ तो इस प्रकार से कहीं मंदिर में गुरुकुल में अच्छी संस्था में उस तीर्थ में तो व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं हिंसा नहीं करूंगा मंदिर में बकरे नहीं मारूंगा कसाई खाने में मारूंगा हिंसा जो करूंगा कसाई खाने में कर लूंगा मंदिर में नहीं करूंगा तो ये जो हिंसा अहिंसा है ये देश की सीमा में बंधी हुई है मतलब एक स्थान पर तो हिंसा करूंगा दूसरे स्थान पर नहीं करूंगा तो शास्त्र कहता है ना किसी भी स्थान पर हिंसा नहीं करनी चाहे मंदिर हो गुरुकुल हो कोई नदी किनारा हो कोई जंगल हो कोई पर्वत हो कोई समुद्र हो कोई ऑफिस हो कहीं पर भी आपको हिंसा नहीं करनी सभी देशों में अहिंसा का पालन करना सभी स्थानों पर आगे बढ़िए सा एव सा एव काल काल अवच्छिन्ना अवच्छिन्ना न चतुर्दश्याम न चतुर्दश्याम न पुण्य अहनी न पुण्य अहनी हनिष्यामी हनिष्यामी इति कुछ लोग कहते हैं आज मंगलवार है आज हम मांस नहीं खाएंगे <laughs> आज हनुमान जी का दिन है आज मांस अंडा नहीं खाएंगे बाकी दिन खाएंगे क्यों भाई मंगलवार को पाप लगता है बुधवार को पाप नहीं लगता है ये कोई बात नहीं तो ये काल की सीमा में बंधकर व्यक्ति अहिंसा का पालन कर रहा है काल में कि चतुर्दश्याम न हनिश्यामी चतुर्दशी को नहीं मारूंगा ठीक है न पुण्य हनि पूर्णिमा को नहीं मारूंगा किसी भी पुण्य दिवस को कोई भी पर्व त्योहार का दिन हो कि उस दिन हम हिंसा नहीं करेंगे उस दिन मां संडे नहीं खाएंगे लेकिन बाकी दिन खाएंगे तो ये काल की सीमा में बंधकर अहिंसा का पालन हो रहा है ये भी ठीक नहीं फिर कहते हैं सा एव सा एव त्रिभीर त्रिभीर उपहत उपर उपर उपरतस्य उपरतस्य समय समय अवच्छिन्न अवच्छिन्न देव देव ब्राह्मणार्थे ब्राह्मणार्थे न अन्यथा न अन्यथा हनिष्यामी हनिष्यामी इति इति अब ये चौथी जो बात है समय की यहां एक बात ध्यान देनी है दो शब्द सूत्र में मिलते जुलते से हैं काल और समय प्राय ये पर्यावाची माने जाते हैं अब यहां सूत्र में दोनों दे रखे हैं तो यहां पर्यावाची नहीं होंगे यहां भिन्न भिन्न अर्थ करना होगा क्योंकि इस सूत्र में जो ये शब्द है जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना इसमें द्वंद्व समास है और व्याकरण शास्त्र का यह नियम है कि जहां द्वंद्व समास हो वहां जितने भी शब्दों का समास है वो सबका अपना अपना मुख्य अर्थ है द्वंद्व समास में सभी शब्द प्रधान अर्थ वाले होते हैं प्रधान पद होते हैं तो जब सभी मुख्य हैं तो फिर सबका अलग अलग अर्थ होना चाहिए इसलिए काल का अर्थ अलग करेंगे समय का अर्थ अलग करेंगे तो काल का अर्थ किया मंगलवार पूर्णिमा पूर्णिमा अमावस्या चतुर्दशी एकादशी कोई भी जैसा अच्छा दिन माना जाता है अष्टमी आदि ये काल हो गया तो समय का अर्थ इससे थोड़ा भिन्न करना पड़ेगा इसलिए समय का अर्थ किया भाष्यकार ने कोई अपना बनाया हुआ विशिष्ट नियम समय का अर्थ है संकेत उसने कोई अपना सांकेतिक नियम बना लिया अपनी सुविधा के हिसाब से तो कह रहे हैं अपनी सुविधा के हिसाब से भी आप अहिंसा हिंसा का पालन नहीं कर सकते ऐसे उसने क्या बनाया त्रिभीर उपरत तीन से तो वो उपरत हो गया छूट गया मतलब जातियों में सभी जातियों में वो अहिंसा का पालन कर रहा है सभी देशों में कर रहा है सभी कालों में कर रहा है अष्टमी एकादशी चतुर्दशी पूर्णिमा आदि अमावस्या को भी वो नहीं मार रहा लेकिन इन सबसे हटकर उसने एक अपना नया नियम बनाया जो समय की सीमा में एक संकेत की सीमा में बंधी हुई अहिंसा है वो कहता है देव ब्राह्मण अर्थे हनिश्याम कोई देव आ गया कोई ब्राह्मण आ गया कोई विद्वान आ गया उसके लिए तो मैं हिंसा कर दूंगा जैसे आजकल के उदाहरण में देता हूं कोई समधि लोग आते हैं ना रिश्तेदारी में समधि दामाद आ गया दामाद का पिताजी आ गया तो रिश्तेदारी में उनको तो नाराज नहीं कर सकते ऐसा माहौल है आजकल भाई तो इनके लिए तो हमको मांस अंडे खिलाने पड़ेंगे ये कहेंगे साहब हमको अंडा करी बना के खिलाओ हमको वो ऑमलेट बना के खिलाओ तो वो नहीं खिलाएंगे तो नाराज हो जाएंगे तो ऐसे रिश्तेदारों को खुश करने के लिए तो हम अंडा करी बना देंगे ऑमलेट बना देंगे फलाना जो भी कहेंगे ला देंगे खिला देंगे और वैसे हम नहीं खाते न और किसी रिश्तेदार को नहीं खिलाएंगे पर इनको तो खिलाना पड़ेगा तो ये एक अपनी सुविधा के लिए नियम बना लिया तो कहने लगे ना ऐसा भी नहीं चलेगा ना था मतलब और अवसरों पे तो हम हिंसा नहीं करेंगे इस अवसर पे करेंगे तो ये है समय की सीमा में बंधा हुआ अहिंसा का पालन तो ये चार तरह की सीमाओं में बंधकर व्यक्ति यदि अहिंसा का पालन करता है तो सूत्रकार उसको मना कर रहे हैं अनवच्छिन्ना इन सीमाओं में बंधना नहीं है तो फिर कैसा करना है आगे बताते हैं अच्छा एक उदाहरण दे रहे हैं आगे इस समय वाला यथा च क्षत्रियाणाम क्षत्रियाणाम युद्धे एव युद्धे एव हिंसा हिंसा न अन्यत्रेति न अन्यत्रेति जैसे क्षत्रियो की युद्ध में तो हिंसा होती है क्षत्रिय कहता है जब युद्ध होगा तब तो मैं हिंसा करूंगा बाकी जगह नहीं करूंगा तो उसका एक अपना नियम होगा अब यहां एक प्रश्न और उठेगा कि क्षत्रिय जो युद्ध में मारकाट करता है क्या वो हिंसा है तो इसका उत्तर है कि यहां क्षत्रिय से जो क्षत्रिय का उदाहरण लिया उससे यह अर्थ लेना है दो क्षत्रिय जब आपस में लड़ते हैं भारत और पाकिस्तान दो देश जब आपस में लड़ते हैं तो दोनों न्याय पर नहीं होते दोनों न्याय पर होते तो झगड़ा होता ही नहीं अब जब झगड़ा हो रहा है तो कम से कम एक पार्टी तो अन्याय पर है ही तो दो पक्षों में से जो अन्याय वाली पार्टी लड़ रही है वो है हिंसा क्योंकि अन्याय का अर्थ ही तो हिंसा है तो जो अन्याय कर रही है वो क्षत्रिय लोग हिंसक है जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं वो हिंसक नहीं है तो यहां इस पंक्ति का अर्थ यह बनेगा भारत पर पाकिस्तान अन्याय कर रहा है उसने हमारी जमीन दबा रखी है और आतंकवादी भेजता रहता है और हम उसको खूब समझाते हैं फिर भी वो मानता नहीं तो तो अन्याय कर रहा है तो पाकिस्तान की तरफ से लड़ने वाले जो सैनिक हैं वो हैं हिंसक वो सैनिक क्या करते हैं वो कहते हैं हम भारत को तंग करेंगे इसको परेशान करेंगे इस पर अन्याय करेंगे इसका शोषण करेंगे इसको हैरान परेशान करेंगे दुखी करेंगे और वो जो इस काम में लड़ रहे हैं वो है हिंसक तो वो कहते हैं चलो हम भारत वालों को तो तंग करेंगे चाइना को नहीं छेड़ेंगे रशिया को नहीं छेड़ेंगे और इंग्लैंड अमेरिका को नहीं छेड़ेंगे पर भारत वालों को तंग करेंगे तो इस प्रकार से जो अन्याय करने वाले सैनिक हैं उन्होंने ये एक अपना सीमित नियम बना लिया कि ये ये हम इस तरह से हिंसा करेंगे तो ये समय की सीमा में बनकर अहिंसा का पालन हो रहा है ये कहना चाहते हैं और जो सैनिक न्याय के लिए लड़ रहा है वो अहिंसा है वो हिंसा नहीं वो तो न्याय कर रहा है तो न्याय करना तो अहिंसा है तो उसको यहां नहीं लेंगे ठीक है जी आगे चले ए भिर जाति जाति देश देश काल काल समय समय अनवच्छिन्ना अनवच्छिन्ना अहिंसादय अहिंसादय सर्वथा एव सर्वथा एव परिपालनीया परिपालनीया अब उपसंहार करते हैं ये भी इन चारों के द्वारा जाति देश काल और समय इन चारों के द्वारा अनवच्छिन्ना सीमाओं में न बंध कर इन चारों की सीमाओं में न बंध कर अहिंसा आदय जो अहिंसा आदि पांच यम है उन सबका या पालन करना चाहिए सर्वथा एवं सब प्रकार से मन से वाणी से शरीर से सब प्रकार से अहिंसा आदि पांचों यमों का पालन करना चाहिए इन सब सीमाओं से ऊपर उठ करके सर्वभूमिशु पढ़िए सर्वभूमिषु सर्व विषयेशु सर्व विषयेषु सर्वथा एव सर्वथा एव अविदित अविदित व्यभिचारा व्यभिचारा सार्वभौमा सार्वभौमा महाव्रतम महाव्रतम इति उच्यंते इति उच्यंते तो ये यम सर्वभूमिषु अर्थात सभी अवस्थाओं में सभी कंडीशंस में सभी परिस्थितियों में सर्व विषयेशु सभी लोगों के प्रति सबके साथ सभी जगह पर सब देश भर में दुनिया भर में सर्वथा एवं अविदित व्यभिचारा सब प्रकार से पूरा नियम पालन करते हुए व्यभिचार का अर्थ होता है नियम भंग करना अविदित का अर्थ है कि जहां नियम भंग नहीं किया गया नियम का भंग विदित नहीं हो रहा पता नहीं चल रहा अर्थात नियम भंग नहीं किया जा रहा सब जगह पूरा नियम का पालन किया जा रहा है सभी देशों में सभी परिस्थितियों में सभी प्राणियों के साथ सभी कालों में ऐसा जब ये यमों का पालन किया जाए तो ये यम सार्वभौमा ये सार्वभौम कहलाएंगे ठीक है हम्म। सभी परिस्थितियों में इनका पालन करना है तब ये महाव्रतम इति उच्चंत तब महाव्रत नाम से कहे जाते हैं तो महाव्रत इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका पालन करने से जीवन हमारा महान उठता है महान बनता है ऊंचा उठता है इसलिए हमको इसका पालन करना चाहिए और इनका नाम महाव्रतम है ये भाष्य पूरा हो गया आगे चलेंगे बत्तीसवां इसकी भूमिका है नहीं, नहीं। सूत्र बत्तीस बोलिए शौच शौच संतोष संतोष तप तप स्वाध्याय स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि ईश्वर प्रणिधानानि नियमा नियमा पांच नियम है सूत्रकार से पांच नियम है उनके नाम है शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये सूत्रार्थ हो गया ये अष्टांग योग में दूसरा अंग है यम पहला अंग था ये दूसरा नियम अब इनकी व्याख्या करते हैं भाष्यम तत्र शौचम तत्र शौचम मृत जलादि जनितम मृत जलादि जनितम मेध्य मेध्य अभ्यवहरणादि अभ्यवहरणादि च च बाह्यम बाह्यम कहते हैं पहला नियम है शौच उनका नाम था यम ये है नियम किसी ने पूछा यम और नियम से क्या तात्पर्य है दिखते तो वो भी नियम है नियम मतलब ठीक ढंग से काम करना वही तो नियम होता है तो उनका भी ठीक ढंग से पालन करना है और इनका नाम भी नियम है तो वो भी तो नियम ही हुए तो इसका उत्तर गुरुजन ये बताते हैं कि ये पारिभाषिक शब्द है यहां पर यौगिक अर्थ नहीं लेंगे नियम कि ठीक ढंग से काम करना वो अर्थ नहीं ले रहे यम एक पारिभाषिक शब्द है नियम एक पारिभाषिक शब्द है तो ये दो वर्ग बनाए गए यमों के पालन में कहीं छूट नहीं है इसलिए जाति देश काल समय अनुवच्छिन्ना सार्वभौम आवृतम इसमें कभी कभी कहीं कहीं छूट हो सकती है परिस्थितिवश वैसे तो विधान सामान्य तो है इनका भी पालन करने का कभी कभी किसी परिस्थिति में इसमें थोड़ी ऊंच नीच हो जाए तो चल जाएगा उसमें नहीं चलेगा इसलिए दो वर्ग बनाए अलग अलग तो अब दोनों में अंतर क्या समझना अंतर यह समझना कि ये जो नियम है पांच शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान इनका अधिक संबंध व्यक्तिगत जीवन से है पर्सनल यमों का संबंध अधिकतर सामाजिक जीवन से ये थोड़ा सा अंतर समझ में आया ऐसा बताया गुरुजनों ने तो जो व्यक्ति का जीवन है वो गौण है और समाज का जीवन है वो मुख्य है इसलिए हम व्यक्तिगत थोड़ा ऊंचा नीचा कर सकते हैं दूसरे को दुख नहीं दे सकते आपके घर में मेहमान आ गए और आपके यहां बिस्तर कम पड़ गए तो क्या आप यूं करेंगे खुद तो ठंड उनको तो ठंड में मारेंगे और खुद बढ़िया गर्म रजाई कंबल में सोएंगे क्या ऐसे करेंगे तो आप क्या करेंगे अपना बिस्तर उसको देंगे भाई तुम अच्छी तरह सो हम तो ऊंचा नीचा कर लेंगे जैसे तैसे भी तो क्या हुआ वहां पर समाज को पहले हमने सुविधा दी और अपना थोड़ा सहन कर लिया ऊंचा नीचा तो समाज को दुख नहीं दे सकते इसलिए जो ये पांच कार्य हैं अहिंसा आदि वो सामाजिक है इसलिए कहा उसमें छूट नहीं कर सकते तो वो वर्ग अलग बना दिया और ये व्यक्तिगत है इसमें ऊंचा नीचा हो जाएगा कभी बुखार आ गया तो नहीं नहाए कोई बात नहीं चलेगा स्नान की छुट्टी हो गई उस दिन जुकाम हो गया सर्दी बुखार हो गया तो उस दिन शौच की छुट्टी कर देंगे स्नान की छुट्टी कर देंगे नहीं नहाएंगे पर वो एक बार झूठ बोलना पड़े तो <laughs> उसकी छूट नहीं हो सकती भाई आज तो मैं झूठ बोलूंगा <laughs> आज तो मुझे झूठ बोलने तो वो वो स्वीकार नहीं होगा स्नान छोड़ दो वो चलेगा इसलिए थोड़ा सा अंतर है शौच आदि नियम व्यक्तिगत प्रधान है वो सामाजिक प्रधान है है दोनों का संबंध यमों का संबंध व्यक्तिगत भी है सामाजिक भी है नियमों का संबंध व्यक्तिगत भी है सामाजिक भी है संबंध दोनों का दोनों से है प्रधानता की बात है हाँ ये नियम व्यक्तिगत जीवन से अधिक संबंध रखते हैं वो सामाजिक से अधिक संबंध रखते हैं बस इतना भेद है करने तो सारे ही दस के दस तो अब दूसरे अंग के अंतर्गत आठ अंगों में से दूसरा अंग है नियम उसमें पहला शौच बता रहे हैं तो कहते हैं शौचम तत्र शौचम इन पांच नियमों में से पहला है शौच वो दो प्रकार का है एक है बाह्य दूसरा आंतरिक तो बाह्य शौच को बताते हैं बाहर की शुद्धि शौच का अर्थ है शुद्धि करना मृत जलादि जनिताओं मिट्टी पानी आदि से उत्पन्न होता है ये शौच मतलब सफाई करना नहाना धोना तो पहले लोग मिट्टी से बर्तन मांजते थे कहीं जंगल में गए कोई और बाल्टी धोनी है कोई आदि आदि बर्तन धोने तो मट्टी से मांझ लेते थे आजकल साबुन आ गए वो हैंड वॉश आ गया लिक्विड आ गया सोप वो तो समय के अनुसार बदलते रहते हैं कोई ना कोई साधन तो होना ही चाहिए ना साफ सफाई के लिए तो मिट्टी आदि से जल आदि से स्नान करना और साबुन से नहाना कपड़े धोना सर्फ से कपड़े धोना आदि आदि तो इस प्रकार से ये जितना भी बाहर की सफाई है ये बाह्य शौच कहलाता है तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा मेध्य आदि च पवित्र भोजन का खाना अभ्यवहरणम खाने को कहते हैं मेध्य का अर्थ है पवित्र शुद्ध सात्विक तो घी दूध फल मिठाई मक्खन मलाई ऐसी अच्छी वस्तुओं को खाओ दाल रोटी सब्जी ये सब चीज खाओ शुद्ध भोजन खाओ शाकाहारी ये सारा बाह्य शौच है और अंडे मांस खाना ये ठीक नहीं है ये अमेध्य है अपवित्र भोजन है इसको नहीं खाना ये अशुद्ध भोजन है तो इस प्रकार से नाना धोना कपड़े धोना झाड़ू पोछा लगाना घर की सफाई रखना मोटर गाड़ी चमकाना जूते चप्पल चमकाना हर चीज साफ सुथरी बढ़िया हाइजीनिक खाना पीना भी बढ़िया साफ सुथरा शुद्ध भोजन उसमें कीटाणु वीटाणु ऐसे नहीं हाथ भी धो करके खाना हाथ में कीटाणु ना हो इस तरह से और फिर धन कमाने में भी ईमानदारी रखना और अच्छी वस्तु बेचकर धन कमाना लकड़ी बेचो कपड़ा बेचो मिठाई बेचो जमीन बेचो मकान बेचो विद्या पढ़ाओ प्रचार करो अच्छे अच्छे काम करके पैसे कमाना अंडे मांस बेच के पैसे नहीं कमाना बीड़ी तंबाकू सिगरेट शराब बेच के पैसे नहीं कमाना वो अशुद्ध कमाई है वो अपवित्र है तो ये सारी बाहर की शुद्धता है बाहर की शुद्धि है धन भी ठीक हो भोजन भी ठीक हो और सब सामान भी साफ सुथरा ये बाह्य शौच हुआ अब दूसरा पढ़ते हैं आभ्यंतरम आभ्यंतरम चित्त मलानाम आक्षालनम आक्षालनम दूसरा आंतरिक शौच है अंदर की शुद्धि करना चित्त मन मन के अंदर बहुत से दोष हैं मल हैं काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष अभिमान राग अविद्या ये सारे मन के अंदर दोष चित्त मलानाम आक्षालना इन चित्त के मलों को साफ करना धो डालना मन को साफ सुथरा बनाओ जैसे घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं ये बाहर की शुद्धि और मन में झाड़ू पोछा लगाओ ये मन की शुद्धि मन में से राग को हटाओ द्वेष को हटाओ काम क्रोध लोह ईर्षा अभिमान इन सब दोषों को बाहर निकालो बढ़िया साफ सुथरा शुद्ध मन होना चाहिए तो ये दो प्रकार की शुद्धि हुई शौच बाह्य और आंतरिक दूसरा नियम है संतोष इसकी व्याख्या हाँ बोलिए प्रश्न तो बताइए तो मन की शुद्धि जो है हम्म। मन सत्य न ठीक है तो एक ऐसा लग रहा है कि जो कारण में यमों का आधार सहयोग तो रहेगा एक दूसरे के सहयोगी जैसे सारे नौ के नौ हम्म। अहिंसा के सहयोगी तो ये आपस में भी एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे आपके टेलीविजन में जितनी पुर्जे होते हैं सब कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं कोई कैपेसिटर है कोई टॉयलेट है कोई कुछ है जो भी होते हैं इसमें साधन वो सब आपस में कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं एक दूसरे की सहायता करते हैं तो ये भी सारे मशीन के पुर्जे हैं एक दूसरे की सहायता करेंगे कहीं अहिंसा इनकी रक्षा में सहयोग करेगी कहीं ये अहिंसा की रक्षा में सहयोग करेंगे सत्य जो है वो शौच में शुद्धि में सहयोग करेगा कहीं तो शुद्धि जो है वो सत्य के पालन में सहयोग करेगी ऐसे मिलजुल करके आपस में इंटरकनेक्टेड तो रहेंगे ही जुड़े रहेंगे तो मन की शुद्धि करना ये आंतरिक शुद्धि हुई दूसरा नियम है संतोष इसका भाष्य पढ़ते हैं संतोष संतोष सन्निहित सन्निहित साधनात् साधना अधिकस्य अधिक अनुपादित सा अनुपादित सा संतोष का अर्थ बताते हैं सन्निहित साधनात् जितने साधन हमारे पास उपलब्ध हैं आज हमें प्राप्त हैं अब तक हमारी जो वर्तमान कैपिटल है संपत्ति ये सन्निहित साधन इन साधनों से हमने मेहनत की और आगे पैसे कमाए व्यापार किया नौकरी की जो भी किया और मेहनत करने के बाद एक महीना काम किया उस एक महीने की मेहनत से जो कुछ प्रॉफिट हुआ जो कुछ लाभ कमाया ये भी सन्निहित साधन की सीमा के अंतर्गत है तो वर्तमान साधनों के आधार पर हम पुरुषार्थ करेंगे पुरुषार्थ करके जो कुछ प्रतिफल मिलेगा यह है सन्निहित साधन तो कहते हैं इतने से अधिक से अनुपादित सा इससे अधिक की प्राप्ति की इच्छा न करना उपादित सा प्राप्ति करने की इच्छा अनुपादित सा अधिक इच्छा नहीं करना तो आपने व्यापार किया मान लिया तो व्यापार में आपने एक महीना काम किया आपको बीस हजार का लाभ हुआ तो बीस हजार में खुश रहो शोर मत मचाओ चिल्लाओ मत हाय हाय मत करो देखो साहब बीस हजार ही मिला तीस मिलता तो अच्छा होता पच्चीस मिलता तो अच्छा होता ये रोना धोना बंद करो रोना नहीं जितना मिला ठीक किसी महीने बीस मिला तो उतना में खुश रहो किसी महीने तीस मिला तो उतना में खुश रहो किसी में अठारह मिला तो अठारह में खुश रहो सत्ताईस मिला तो सत्ताईस में खुश रहो जितना मिला उतना में खुश रहो उससे अधिक की इच्छा मत करो उस समय लोभ की इच्छा मत करो कि और मिलता तो अच्छा होता जो मिला बहुत अच्छा है भगवान का धन्यवाद और सब लोगों का धन्यवाद इतना हमको सहयोग मिला इससे हमारा इतना काम चल गया बहुत अच्छा रहा ऐसे सोचना चाहिए यह है संतोष मान लो इस महीने आपने सत्ताईस कमाया फिर आपको लगता है भाई सत्ताईस तो कम पड़ता है थोड़ा और अधिक होना चाहिए तीस पैंतीस होना चाहिए अगले महीने पैंतीस का टारगेट बनाओ फिर मेहनत करो और अगले महीने आपको पैंतीस का भी चालीस मिल गया तो चालीस में खुश रहो फिर अगले महीने काम किया फिर बाईस ही मिला तो बाईस में भी खुश रहो खुश रहना जितना मिले उतने में खुश रहना शिकायत नहीं करनी बस इसका नाम संतोष है बाईस मिले तो बाईस चालीस मिले तो चालीस सत्ताईस मिले तो सत्ताईस जो मिले उतने में खुश रहो जो नहीं मिला उसको मत देखो जो मिला उसको देखो हाँ तो उसके लिए प्रोटेस्ट करो आंदोलन करो विरोध करो भाई तुम अन्याय कर रहे हो ऐसे नहीं चलेगा दुखी नहीं होना उसको न्यायपूर्वक उसको सूचित करना है उसको सावधान करना है अपना अधिकार प्राप्त करना है अपना अधिकार मांग सकते हैं उसमें आपत्ति नहीं है लोभ नहीं कर सकते यहां लोभ का निषेध है अधिकार मांगने का निषेध नहीं है जो हमारा हक बनता भी हमारा चालीस बनता है हक चालीस लाओ अगर हम नौकरी कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं और हमारा हक चालीस बनता है तो चालीस लो वो कहता है साहब बत्तीस देंगे नहीं नहीं फिर हम काम नहीं करेंगे हमारी मेहनत का पूरा वसूल नहीं हो रहा है हम यहाँ काम नहीं करेंगे हम दूसरी जगह करेंगे जब हमारे काम की कीमत चालीस है तो चालीस में न्याय से मिलना चाहिए तो न्यायपूर्वक काम में कोई आपत्ति नहीं है और बनता है चालीस और हम लोभ करते हैं पचास का तो गड़बड़ है तो संतोष नहीं है नौकरी में तो ये उत्तर है क्योंकि वहां तो बंदी बंगाई तनख्वाह है वहां तो हर महीने फिक्स मिलने वाली है तो वहां हम इस तरह से सोचेंगे कि जब हमारी मेहनत का चालीस बनता है तो हमको चालीस मिलना चाहिए कोई बत्तीस देगा तो काम नहीं करेंगे और वहां पचास की भी इच्छा नहीं करेंगे चालीस की कीमत है चालीस ले लो अब व्यापार में ऐसा कोई फिक्स होता नहीं व्यापार तो अनसर्टेन है अनिश्चित है कभी हमें वो बत्तीस भी मिलेगा कभी बारह भी मिलेगा कभी साठ भी मिल जाएगा तो व्यापार में तो फिर जितना मिले उतना उसमें कोई सीमा नहीं है मतलब न्यायपूर्वक जितना हम काम करते हैं उस हिसाब से जो हमको मिल जाता है कभी कम मिलता है कभी अधिक मिलता है जितना भी मिले उतने में खुश रहना बस इसका नाम है संतोष आलसी नहीं होना संतोष का मतलब आलसी होना नहीं है कि चलो जो हमारी किस्मत में है मिल जाएगा क्या ज्यादा हाय हाय हाय हाय क्या करनी क्या भागम भाग क्या करनी जो होगा हो जाएगा ठीक है अपना पड़े रहो ये आलस्य है आलस्य नहीं करना लक्ष्य बनाइए पूरी मेहनत कीजिए और जो मिले उतना में खुश रहिए ये है संतोष जो संतोष का पालन करता है वो सदा सुखी रहता है वो कभी दुखी नहीं होता ठीक है जी आगे चलिए तपो द्वंद्व सहनम तपो द्वंद्व सहनम तप का अर्थ है द्वंद्वों का सहन करना द्वंद्व मतलब जोड़े दो दो के पेयर हानि लाभ सुख दुख मान अपमान भूख प्यास गर्मी ठंडी बैठे रहना खड़े रहना ये दो दो के जोड़े हैं कुछ शारीरिक है कुछ मानसिक है तो जीवन में ये दोनों युवक जोड़े उपस्थित होते रहते हैं सुख भी आता है दुख भी आता है हानि भी होती है लाभ भी होता है कभी सम्मान होता है कभी अपमान होता है कभी न्याय होता है कभी अन्याय होता है तो कभी भूख लगती है कभी प्यास लगती है कभी टाइम पर खाना मिलता है कभी लेट मिलता है कभी गर्म मिलता है कभी ठंडा मिलता है तो सब तरह की परिस्थिति आती रहती है तो जैसी भी आए हर परिस्थिति में खुश रहना दुखी नहीं होना उसको खुश होकर सहन करना सहन तो करना ही पड़ेगा अब ट्रेन लेट हो गई <laughs> आप क्या कर लेंगे वो अनाउंस कर रहे हैं कि साहब ट्रेन एक घंटा लेट है तो क्या करेंगे बैठे रहो अब वो एक घंटा सहन करना पड़ेगा लेट अब खुश होके सहन करो चाहे दुखी होके करो वो तो करना ही पड़ेगा तो नियम ये कहता है योग का अभ्यास ये कहता है वो जो एक घंटा लेट हुई ट्रेन उस कष्ट को खुश होकर सहन करो ये तप है दुखी होकर सहन किया तो मजबूरी है फिर वो तप नहीं है उसका आपको फल नहीं मिलेगा तप करोगे तो बढ़िया फल मिलेगा आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी क्षमता बढ़ेगी मन शांत रहेगा व्यवस्थित रहेगा परेशानी नहीं होगी उद्विग्नता नहीं होगी क्रोध नहीं आएगा और ठीक ठाक अपना जीवन चलता रहेगा इस तरह से हमको तप करना है तो भूख लगती है खाना एक घंटा लेट मिला कोई बात नहीं उसको सहन करने के लिए तीन शब्द हैं कोई बात नहीं आधा घंटा लेट हुआ एक घंटा लेट हुआ तीन शब्द बोलो कोई बात नहीं बहुत बढ़िया सूत्र है मिल गया तो ठीक है नहीं मिला तो कोई बात नहीं एक घंटा लेट हुआ कोई बात नहीं बस ऐसे करो और अपना मस्त हो जाओ खुश रहो इसका नाम तप है तो हानि लाभ सुख दुख जो भी आता रहे कभी मान होगा कभी अपमान होगा कोई अच्छी बात कहेगा कोई खराब कहेगा कोई हमारा गुण बताएगा कोई दोष बताएगा कोई सही बात कहेगा कोई झूठा आरोप लगाएगा ये तो चलता ही रहेगा हर एक की बुद्धि अलग अलग है सब लोग हमारी सच्चाई को समझते नहीं सब लोग तो ईश्वर को भी नहीं समझते हमको क्या समझेंगे ईश्वर को लोग गाली देते हमको क्यों नहीं देंगे तो लोगों को इस बात से बड़ा कष्ट होता है देखो साहब मुझ पर झूठा आरोप लगाता है अरे तो क्या आश्चर्य की बात है झूठा लगाता है तो भगवान को कौन छोड़ता है भगवान पे इतने झूठे आरोप लगते हैं तो वो भी तो शांति से बैठा है ना को रोने थोड़ी बैठ जाता है वो रोता नहीं है मस्त रहता है जब सर्वगुण संपन्न ईश्वर को भी लोग ठीक नहीं समझते जिसमें एक भी दोष नहीं है कभी वो अन्याय नहीं करता उसको भी गाली खानी पड़ती है तो हम और आप क्या चीज है हमको तो कौन समझेगा हमारे अंदर तो कितनी सारी कमियां हैं कितने सारे दोष भी हो सकते हैं तो हमको कोई गाली दे तो क्या आश्चर्य की बात उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है इसलिए वहां पर दुखी नहीं होना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए और ये सोच के चलना चाहिए ये तो संसार है ये ऐसे ही चलता है ऐसे ही चलेगा हम सबको खुश नहीं कर सकते सबको क्या एक व्यक्ति को भी सौ परसेंट खुश नहीं कर सकते एक आदमी को भी उसकी इतनी सारी इच्छाएं और हम अल्पशक्तिमान हैं हम उसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते इसलिए एक सीमा के बाद हमको ब्रेक लगानी पड़ती है बस भैया इससे आगे मैं नहीं कर सकता अब आगे तुम जाओ फिर वो नाराज हो या जो भी हो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो इस प्रकार से हानि लाभ सुख दुख को सहन करना ये द्वंद्वों को सहन करना ये तप कहलाता है तप की व्याख्या में आगे बताते हैं द्वंद्वश्च द्वंद्वश्च जिघत्सा पिपासे जिघत्सा पिपासे स्थान शीतोष्णे स्थान आसने काष्ठ मौन काष्ठ मौन आकार मौने आकार मौने च तो ये द्वंद्वों के थोड़े से उदाहरण दिए जिघत्सा मतलब भूख खाने की इच्छा जिघत्सा खाने की इच्छा पिपासा पीने की इच्छा प्यास तो भूख प्यास ये दो का जोड़ा हो गया ये द्वंद्व हो गया शीत औष्ण गर्मी और ठंडी कभी गर्मी पड़ती है मई जून में दिसंबर जनवरी में ठंडी पड़ती है तो कभी वो परेशान करती है कभी वो परेशान करती है ऐसे ये द्वंद्व हो गया स्थान आसन है स्थान का मतलब खड़े रहना अब आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं ट्रेन आई आने वाली है और आई नहीं आधा पौना घंटा हो गया सीट है नहीं सब लोग बैठे हैं सीटें घेर कर आपको खड़े ही रहना पड़ा या ट्रेन में कभी बस में खड़े खड़े जाना पड़ा सीट नहीं मिली तो वो कष्ट होता है उसको सहन करो और आज में दो दो घंटे बैठना पड़ता है क्लास में दो घंटे बैठना पड़ता है उठने नहीं देते हम शिविर में कई घंटे बिठा के रखते हैं सारा दिन थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर बैठो फिर घूम आओ फिर बैठो तो लोग बेचारे थक जाते हैं टांगे दुखती हैं सारा दिन बैठना पड़ता है शिविर में कष्ट होता है उसको सहन करो ये तप है तप वो है जिसको करने से हमारी अपनी उन्नति हो समाज की उन्नति हो देश की उन्नति हो किसी ना किसी को फायदा होना चाहिए ऐसा कष्ट उठाओ वो तप अब फालतू में एक टांग ऊंची करके खड़े बारह साल तक पेड़ के साथ लटक के ये कोई तप नहीं है इसमें ना अपनी उन्नति है ना समाज की ना देश की कोई उन्नति नहीं तो वो तप नहीं है वो तो खाली दिखावा है प्रदर्शन वैसा तप नहीं करना चाहिए तो कभी कहीं बैठना पड़ जाए लंबे समय तक तो बैठो कष्ट को सहन करो खड़े रहना पड़े वो कष्ट भी सहन करो ये तप है काष्ठ मौन आकार मौन है काष्ठ मौन का मतलब होता है लक्कड़ की तरह ऐसे बैठे रहो कुछ नहीं बोलना मौन आकार मौन का मतलब होता है वाणी से नहीं बोलेंगे संकेत करेंगे भोजन कर रहा एक आदमी आया रोटी बांटने वाला हिसाब रोटी दू तो हम कहेंगे मुंह से नहीं बोलेंगे इशारा करेंगे ये आकार मौन है फिर एक रोटी रख दी हमने खा ली फिर आया बांटने वाला रोटी और दू प्यारे से काम करेंगे आकार से संकेत से ये आकार मौन है बोलना नहीं काष्ट मौन में बंद कमरे में घुस जाएंगे किसी की शक्ल भी नहीं देखना बात भी नहीं करना कोई इशारा भी नहीं करना जब भूख लगेगी तो कोई खाना रख जाएगा दरवाजे के बाहर दरवाजा खोल के खाना खींच लेंगे दरवाजा बंद कर देंगे किसी की ना शक्ल देखेंगे ना बात करेंगे पूरा दिन अपना साधना करेंगे भूख लगी खाना खा लेंगे फ्रेश होना होगा बाथरूम में चले जाएंगे चुपचाप काम करते रहेंगे इसको कास्ट मौन कहते हैं तो ये भी एक अभ्यास है कभी कभी ये भी कर कर सकते हैं साल दो साल में एक आध बार एक दिन दो दिन काष्ठ मौन कर लिया कभी दो चार महीने में एक दिन आकार मौन कर लिया और दो तीन घंटे तो रोज भी कर सकते हैं मौन जैसे सुबह पांच बजे उठ गए चार बजे उठ गए तो सात बजे तक मौन बात नहीं करना अब बच्चा हो घर में तो ये संभव नहीं है <laughs> वो तो बोलेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा इसलिए गृहस्थी में ये समस्या रहती है गृहस्थ में पूरा नहीं हो पाता पर जंगलों में आश्रमों में तो हो सकता है सुबह चार बजे घंटी बजती है गुरुकुल में संस्था में चार बजे उठ गए सात बजे तक तीन घंटा मौन कोई बात नहीं चुपचाप अपना काम करो नाना धोना व्यायाम करना ध्यान करना स्वाध्याय करना जो भी करना चुपचाप सारा काम करो बातचीत नहीं करनी ये इतना तो हर रोज हो सकता है घर गृहस्थ में एक आध घंटा तो यहां भी हो सकता है अब बच्चा उठेगा छह बजे आप उठ गए चार बजे या पांच बजे तो पांच से छह एक घंटा तो मौन रख ही सकते हैं तो ऐसा एक घर में रहते हुए भी व्यक्ति थोड़ा सा नियम बनाए कि कम से कम एक घंटा तो मुझे भी रोज मौन रखना ही रखना है तो उससे बहुत शक्ति मिलती है शांति मिलती है मन पर इंद्रियों पर संयम बढ़ता है काम क्रोध लोभ आदि दोषों को व्यक्ति जीत लेता है उसकी अंतर्मुख वृत्ति बढ़ती है सहन शक्ति भी बढ़ती है तो ये वाणी पर भी कंट्रोल होता है संयम बढ़ता है ऐसे बहुत सारे लाभ होते हैं तो ये इतना मौन तो करना चाहिए तो ये सारा तप कहलाता है मौन रहना व्रतानी च व्रतानी चेषाम यथा योगम यथा योगम कृच्छ्र कृच्छ्र चांद्रायण चांद्रायण शांत पनादिनी शांत पनादिनी ये कुछ और व्रतों के नाम दिए इन्होंने कोई इनके नाम मानुस्मृति आदि में भी मिलते हैं पर ये कुछ ठीक नहीं है ये प्रक्षेप लगता है कुछ तो मिलावटी बात है ये क्योंकि बुद्धिमत्ता पूर्वक नहीं तो व्रतों का नाम इन्होंने ऐसे बताए ऐसा यथा योगम जैसे यथा योग्य हो परिस्थिति के अनुसार एक कृच्र व्रत है एक चांद्रायण व्रत है एक शांतपन व्रत है तो व्याख्या भाषा में देख लीजिएगा तो हम तो इसको प्रक्षिप्त मानते हैं इसलिए छोड़ देते हैं <clears throat> इसमें क्या होता है कि कभी चंद्रायण व्रत ऐसा होता है कि व्यक्ति एक एक भोजन एक एक ग्रास कम करता जाता है अच्छा। चंद्रमा की कलाओं के समान जैसे कृष्ण पक्ष में एक एक कला घटती जाती है तो पंद्रह दिन तक चंद्रमा घटता घटता घटता अमावस्या पे आ जाता है तो व्यक्ति पंद्रह भोजन के ग्रास खाता था चार रोटी में पंद्रह टुकड़े करके खाता था तो रोज रोज की रोज एक टुकड़ा कम करता जाता है और अमावस्या के दिन पूर्ण उपवास कुछ नहीं खाना फिर शुक्ल पक्ष में एक एक कला बढ़ती जाती है तो एक एक टुकड़ा फिर शुरू करता है तो महीने भर में उसका एक चंद्रायण व्रत हो जाता है ऐसा पर ये कोई खास बुद्धिमत्ता वाला नहीं दिख रहा तो ये इसकी आवश्यकता नहीं है इसको हम छोड़ देते हैं पिछले वाले तब ठीक है मौन रहना साधना करना ध्यान करना और खड़े रहना बैठे रहना कष्ट उठाना उसमें जो भी आवश्यक होता है ठंडी गर्मी सहन करना वो ठीक है तब तो वो कर लेना चाहिए चौथी बात है स्वाध्यायो स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम अध्ययनम प्रणव जपो प्रणव जपो स्वाध्याय का अर्थ है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना जो हम कर रहे हैं ये स्वाध्याय चल रहा है मोक्ष शास्त्र हैं वेद दर्शन उपनिषद मनुस्मृति सत्यार्थ प्रकाश आदि आदि जिन शास्त्रों में मोक्ष का स्वरूप बतलाया है मोक्ष क्या होता है मोक्ष कब मिलता है किसको मिलता है कैसे मिलता है मोक्ष प्राप्ति के उपाय क्या है मोक्ष प्राप्ति में बाधक क्या है उन बाधनों बाधकों को दूर कैसे करें आदि आदि ये सारा टॉपिक्स मोक्ष संबंधी जिन शास्त्रों में है उसका नाम है मोक्ष शास्त्र तो उनका अध्ययन करना ये स्वाध्याय कहलाता है अब स्वयं तो कोई किताब पढ़ने से आती नहीं समझ में कोई अध्यापक चाहिए वो बताएगा एक एक बात को खोल के समझाएगा तो समझ में आ जाएगा फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो कंप्यूटर हो इंग्लिश हो कोई भी सब्जेक्ट हो टीचर के बिना समझ में नहीं आता तो ये दर्शन वेद उपनिषद भी बिना टीचर के तो नहीं आएगा समझ में इसलिए किसी अध्यापक से अच्छी तरह बैठ के पढ़ना समझना ये है अध्ययन करना स्वाध्याय और प्रणव जपोवा ओम का जप करना दिन में थोड़ा टाइम मिला पांच दस मिनट ओम का जप कर लिया सुबह शाम बैठ के ध्यान कर लिया वो तो ध्यान के अंतर्गत आ जाएगा और दिन में कभी दो मिनट भी मिला पांच मिनट भी मिला तो ओम का जप कर लिया ये स्वाध्याय के नाम से हो जाएगा इस तरह से स्वाध्याय में दो बातें हैं शास्त्रों का अध्ययन और ओम का जप तो जब कभी भी कर सकते हैं सारे दिन कोई दिक्कत नहीं और आत्मनिरीक्षण आत्मनिरीक्षण वो आ जाएगा किस में आएगा वो ईश्वर प्रणिधान में आ जाएगा आत्मनिरीक्षण पांचवे में आ जाएगा उसमें इसमें तो जप करने का आएगा ओम का जप अब वो पांचवा आ रहा आगे पढ़िए ईश्वर प्रणिधानम ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन तस्मिन परम गुरु परम गुरु सर्व कर्म सर्व कर्म अर्पणम अर्पणम ये ईश्वर प्रणिधान है समर्पण ईश्वर समर्पण प्रणिधान का मतलब समर्पण क्या है समर्पण तस्मिन परम गुरु उस परम गुरु परमात्मा में जो सबका गुरु है सब गुरुओं का गुरु है सयशा पूर्व शाम अपी गुरु जैसा पहले बताया था तो जो सबका गुरु है सबसे बड़ा गुरु है सब गुरुओं का गुरु है उस परमात्मा में सर्व कर्म अर्पण सारे कर्म उसके सामने प्रस्तुत करना उसके सामने रख देना और उसके हवाले कर देना हमने ये कर्म कर दिया आपसे पूछ के किया आपकी इच्छानुसार किया आपकी सम्मति से किया आपकी दी हुई शक्ति से किया ये आपके सामने किया अब इसका फल आपके हवाले ये कर्म आपके हवाले इसका फल जो आपको उचित लगे दे देना और हमें तो ये इच्छा है कि मोक्ष दे देना और बार बार जन्म लेना तो ठीक नहीं है तस् हेतु अविद्या भस जाएंगे यहां दुनिया में फिर अविद्या बढ़ जाएगी फिर दुख भोगेंगे तो हमें जन्म मरम कुछ नहीं चाहिए हमें तो मोक्ष दे देना इस तरह से कर्मों को ईश्वर के समर्पित करना ये ईश्वर प्रणिधान कहलाता है तो ये सारा व्यक्तिगत है तपस्या भी व्यक्तिगत है स्वाध्याय भी स्वयं करना है और समर्पण भी हम हम नहीं करना है ईश्वर के सामने संतोष का पालन भी हमें करना है शुद्धि सफाई भी खुद की करनी तो पांचों का संबंध व्यक्तिगत जीवन से अधिक है बाकी इसका थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट समाज के ऊपर पड़ता है इसलिए इस ग्रुप को अलग कर दिया व्यक्तिगत प्रधान यम को सामाजिक प्रधान अब एक अंतम श्लोक है इसको और पढ़ लेते हैं शय्यासनस्थोऽथ पथि वा शय्यासनस्थोऽथ पथीव्रजन्वा स्वस्थः परिक्षीणवितर्कजालः स्वस्थः परिक्षीणवितर्कजालः संसारबीजक्षयमीक्षमाणः संसारबीजक्षयमीक्षमाणः स्यान्नित्यमुक् मृतभोगभागी मुक्तो भागी बहुत अच्छा बताया ईश्वर प्रणिधान का फल उसकी स्थिति बताई कि जो ईश्वर प्रणिधान करता है ऊंचे स्तर का व्यक्ति जो थोड़ा अच्छा वैराग्यवान है वो सारा दिन अपने सारे कर्मों को ईश्वर के साथ समर्पित करता रहता है ईश्वर को पकड़ के चलता है उसको छोड़ता ही नहीं सारा दिन ईश्वर के साथ ही जीता है वो जैसे आम आदमी दुनिया वालों के साथ जीता है कभी कंप्यूटर के साथ जीता है कोई टीवी के साथ जीता है कोई भाई भतीजों के साथ जीता है वो ईश्वर के साथ जीता है और क्या करता है हो चाहे बिस्तर पे लेटा हो चाहे आसन पर बैठा हो कुर्सी पे बैठा हो आसन पे जमीन पर बैठा हो चाहे बिस्तर में लेटा हो जैसा भी हो अथवा पथि व्रजन व अथवा सड़क पे घूम रहा हो सैर कर रहा हो शाम को इवनिंग वॉक सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हो कुछ भी परिस्थिति में हो वो ईश्वर प्रणिधान करने वाला व्यक्ति स्वस्थ वो स्वस्मिन स्थित वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता है वो अपने आत्मा को शरीर आदि से अलग जानता है और उस इसी बात में मस्त रहता है मैं आत्मा हूं ये शरीर संसार सब अलग है और ईश्वर इन दोनों से अलग है इस तरह से वो अपने आत्म स्वरूप को ठीक से पहचानता रहता है परीक्षीण वितर्क जाला वितर्कों का जो जाल है वितर्क अभी आगे बताएंगे वितर्क हिंसा दया जो हिंसा झूठ चोरी आदि आदि जितने भी बुरे काम है यम नियम के विरुद्ध आचरण सारे के सारे दस वो है वितर्क तो वितर्क जाल को वो परीक्षीण नष्ट करता रहता है सारा दिन अपने अंदर उसकी लड़ाई चालू रहती है वो हिंसा का विरोध करता है झूठ का विरोध करता है चोरी का विरोध करता है हिंसा नहीं करूंगा झूठ नहीं बोलूंगा चोरी नहीं करूंगा ईमानदारी से जीऊंगा बढ़िया ढंग से जीऊंगा सुख सुख सुख से युक्त होकर जीऊंगा दुखी परेशान चिंता में तनाव में नहीं जीऊंगा तो वो ऐसे करता रहता सारा दिन और क्या करता है संसार बीज क्षयम ईक्षमाण संसार यानी बार बार जन्म लेना संसार में बार बार जन्म लेना उसका बीज है अविद्या उस अविद्या के क्षय को देखता हुआ तो वो सारा दिन ये काम करता रहता है और वो देखता रहता है मेरी अविद्या नष्ट हो रही है कमजोर हो रही है घटती जा रही है ऐसे ऐसे वो महसूस करता है मेरी अविद्या घटती हटती जा रही है सियात नित्य मुक्त हो वो सदा हर समय चिंताओं से मुक्त रहता है टेंशन से मुक्त रहता है तनाव से बुरे कामों से छूटा रहता है बचा रहता है और अमृत भोग भागी ईश्वर के साथ जुड़े रहने से ईश्वर उसको सुख देता रहता है आनंद का वो भोग करता है चिंताओं से दूर रहता है मस्त रहता है ये ईश्वर पर निधान की स्थिति है तो जो ईश्वर को साथ जोड़कर चलेगा वो ऐसा जिएगा मस्त रहेगा इससे बढ़िया कोई लाइफ नहीं इससे बढ़िया कोई जीने का ढंग नहीं तो ऐसा करना चाहिए यत्र इदम उत्तम यत्र इदम उत्तम ततः ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो प्रत्यक चेतनाधिगमो अभी अपि अंतराय अंतराय अभावश्च अभावश्च तो ये ईश्वर प्रणिधान के संदर्भ में पहले ये बात कही जा चुकी है कि वहां ईश्वर प्रणिधान करने से तथा ईश्वर प्रणिधान करने से प्रत्येक चेतना अधिगम आंतरिक चेतन तत्व की प्राप्ति होती है परमात्मा की प्राप्ति होती है समाधि लगती है अभी जीवात्मा की भी प्राप्ति होती है उसका स्वरूप भी पता चलता है और अंतराया भावश और जो अंतराय है उनका भी अभाव हो जाता है व्याधि स्त्यान संशय आदि जो शत्रु हैं योगाभ्यास के वो सब भी नष्ट हो जाते हैं तो ये बात पहले कही जा चुकी है उसी को हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं ठीक है जी तो ये पूरा हो गया सूत्रार्थ भी पूरा हो गया एक बार हम बोलेंगे ओ सर्वेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः सबको सादर नमस्ते जी सबको सादर नमस्ते जी